बाब नंबर सात जेबें खाली कर दो अहमद शाह बोला चल गामे तू पहले कर गुलाम हुसैन ने जेब में हाथ डालकर रेजगारी निकाली और मेज़ पर फैला दी कुल एक रुपया सलीमे अहमद शाह ने हुक्म दिया सलीम ने भी जेब से सिक्के निकाले और मुट्ठी पे ही गिनकर मेज़ पर ढेर कर दिए एक रुपया दो आने अहमद शाह ने मुंह से बोले बगैर आईब्रो उठाकर सरफराज की जानब देखा सरफराज ने पैसे जेब से निकाले और गिनकर मेज़ पर रख दिए सरफराजे अहमद शाह धमका कर बोला वापस जेब में क्या डाल रहा है अठन्नी है सरफराज ने कहा इसका कुल्फ़ा खाएगा चल निकाल सरफराज ने अठन्नी जेब में रख ली कराया है कैसा कराया कल वापस घर नहीं जाना तू बस का किराया देता है हाँ अहमद शाह ने सर पीट लिया ओए तू पेंडू का पेंडू ही रहा किराया कौन देता है तीन रुपये दस आने हो गए सलीम ने सारे सिक्के मेज़ पे इकट्ठे करते हुए कहा तेरे पास कितने हैं शाह अहमद शाह ने हाथ कमीज़ की बगल वाली जेब में दाखिल किया जब निकाला तो उल्टी जेब अंदर से निकलती हुई आई उसकी उंगलियों में चंद सिक्के थे मेरे पास तो यही कुछ है उसने सिक्के सलीम की हथेली पर रख दिए बारह आने सलीम ने पूछा देख लो अहमद शाह उल्टी जेब का कपड़ा जिसकी सिलाई मैल की वजह से स्याह हो चुकी थी हाथ से फटक कर दिखाते हुए बोला साढ़े चार थोड़े हैं पेट भी नहीं भरेगा गुलाम हुसैन ने मुर्दा से लहजे में कहा मैंने कहा था आज फैशन होगा अहमद शाह मुक्का हवा में लहरा कर बोला तो साढ़े चार में फैशन ही होगा कैसे होगा मेरे ऊपर छोड़ दो बस चले आओ लड़कों ने चारपाइयों से हिलने में तवक्कुफ किया वहीं बैठे बैठे कमरे के नीम अंधेरे में देखते रहे फिर उन्होंने झुक झुक कर ज़मीन पर नज़रें दौड़ाईं जैसे जूतों की तलाश में हों गो जूते सामने ही रखे थे उसके बाद वो उठे और मोमबत्ती की रोशनी में एहतियात से चलते हुए दीवार तक गए जहाँ एक के बाद दूसरे ने छोटे से शीशे के सामने सुस्त रवि से बालों में कंगी की सिर्फ गुलाम हुसैन जिसके सर पे लोहे के बारीक तारों कैसे बालों की टोपी बनी हुई थी जिसने कभी कंगी की शक्ल ना देखी थी अपने बूटों पे झुका मैले कपड़े से उन्हें चमकाने की कोशिश करता रहा दूध रस मंगवाकर खा लेते हैं सलीम ने कहा अहमद शाह ने बड़ा सा सर हिलाया कहीं बैठकर खाते हैं कल पता नहीं क्या हो मगर अहमद शाह की आवाज़ में पहला सा जोर ना रहा था बाकी तीनों लड़के कमरे में इधर उधर खड़े थे गोया मुस्तकबिल की तमाम तर उम्मीद खो चुके हों चंद मील के फासले पर मैदान कारजार गर्म था जंग को छिड़े हुए आठवां रोज़ था ब्लैकआउट का सायरन आधा घंटा हुआ बच चुका था इसके बाद दस मिनट के बाद बिजली भी चली गई थी मेज़ पर एक ट्रांजिस्टर रेडियो बैटरी के ज़ोर पे चल रहा था जिसकी आवाज़ हल्की कर दी गई थी मगर महाजे जंग की खबरें नशर करने वाले आदमी की आवाज़ भारी और बारोब थी लड़के उसकी सुनी अनसुनी कर रहे थे जैसे सुन सुनकर उकता चुके हों सरफराज ने खिड़की पर लटके हुए कोने का पर्दा सिरका कर देखा बाहर गली में अंधेरा था अहमद शाह ने फूक से मोमबत्ती बुझा दी कमरे से निकलकर उसने कुंडी लगाई और ताला चढ़ा दिया चारों लड़के तारीकी में सीमेंट की सीढ़ियों पर जमा जमा कर कदम रखते हुए उतरने लगे उनका चौराहा तीसरी मंजिल पे था उनका जो बारह तीसरी मंजिल पे था दूसरी मंजिल पे एक कमरे में उसी कॉलेज के चंद सीनियर लड़के रहते थे सरफराज और उसके साथी जब उनके कमरे के सामने से गुजरे तो अंदर से ऊंची आवाज़ें सुनाई दीं जैसे कोई जोश में आकर बोल रहा हो कमरे में अंधेरा था रेडियो के डायल की कमज़ोर सी रोशनी और जलते हुए सिगरेटों के तीन नुक्तों की लो में पांच नौजवान चेहरों के धुंधले से खदोखाल दिखाई दे रहे थे हराम की मौत है बोलने वाले की आवाज़ में गुस्से और अफसोस की मिली जुली कैफियत थी छोड़ यार दूसरे लड़के ने कहा ऐसी बात ना कर तूने अपनी ड्यूटी अदा कर दी है कौम पर सख्त वक्त आया है खुदा का शुक्र कर कि बच कर आ गया है अब कोई मेरा टेटवा दबा के कहे तो फिर भी उधर का रुख ना करूं। पहले ने बात जारी रखी वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं अहमद शाह और उसके दोस्त आगे चल पड़े कमरे में रेडियो की नहायत हल्की आवाज़ पस मंज़र में शहीद होने वालों के नाम गिना रही थी बाजवा है सलीम ने गली में पहुँच कर बताया कौन बाजवा वही थर्ड ईयर वाला केमिस्ट्री के डिमॉन्स्ट्रेटर का भाई इतनी तकरीर क्यों कर रहा है वॉल्ट्रों में गया था बड़ा जिच होकर आया है अच्छा अहमद शाह ने सर हिलाकर कहा वॉल्टियर बनकर गया था फिर रोता किस लिए है कहता है उधर कोई पूछने खिंचने वाला नहीं था तो क्या बैंड बाजे के साथ इनका इस्तकबाल होता कहता है दिन रात मज़दूरों की तरह एमुनेशन के क्रेड धोते रहे और किसी ने पानी तक ना पूछा बम धमाकों के अंदर सड़क पर भूखा प्यासा छोड़ गए तुम्हें उसने ये सब कुछ बताया है दोपहर को हॉस्टल में इमरान के कमरे में बैठा था झूठ बोलता है सरफराज ने कहा डर कर भाग आया है दोपहर को वहाँ पे तीन चार और वॉल्टियर भी थे सलीम ने कहा वो भी यही कुछ कह रहे थे क्या कह रहे थे कि जाती दफ़ा कहा गया था खाने पीने और रहने का बंदोबस्त होगा मैं कहता हूँ डर कर भाग आए हैं सरफराज ने जोश से कहा चुप कर यार अहमद शाह ने कहा फिर वो सलीम से मुखातिब हुआ अच्छा और क्या कहते थे इसके अलावा डेली अलाउंस का भी वादा था वहाँ जाकर किसी ने खैर खबर भी ना ली लावारसों की तरह सामान ढो ढोकर मर गए ना रोटी ना पानी चारों लड़कों पर अचानक खामोशी छा गई गलियां तारीख थीं एक टूटी हुई ईंट पर सरफराज का पाँव उल्ट पड़ा उसके टखने से दर्द की टीस उठी तो उसके मुंह से भी गाली निकली उसके दिल में एक नामालूम सा गुस्सा उबल रहा था उसे एहसास हुआ कि कोने खुदरों में छुपी हुई तारीखियाँ अजीबो गरीब शक्लें इख्तियार करके उसे घूर रही हैं किधर जा रहे हो वो तेज़ लहजे में बोला मैं तो इन गलियों में पहले कभी नहीं आया बस चले आओ अहमद शाह ने कहा थोड़ा सा फासला रह गया है कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे इस नान भाई की दुकान का पता है जिसका खाना सारे शहर में मशहूर है मशहूरी तो जहर खिलाने वालों की भी हो जाती है गुलाम हुसैन ने कहा नहीं इसका खाना कमाल का है सस्ता और मज़ेदार दो चार मज़ीद तंग गलियों में से गुजरने के बाद आखिर अहमद शाह एक चौड़ी सी दुकान पर जा पहुंचा और उसके आगे जाकर रुक गया दुकान की सारी चौड़ाई पर भारी तरपाल लटक रही थी जिसके किनारों से मध्यम सी रोशनी झलक रही थी अहमद शाह ने एक तरफ से तरपाल उठाई और चारों लड़के एक दूसरे के पीछे दुकान में दाखिल हो गए आओ बाऊजी बैठो ओए जीरिया टूटे हुए दांतों और बड़ी हुई दाढ़ी वाला नान भाई आवाज़ देने लगा जा मेज़ साफ़ कर अहमद शाह ने अपने साथियों को मेज़ पर जाकर बैठने का इशारा किया और ख़ुद बेतकल्लुफ़ी से दो बड़े देशकों के ढकने उठाकर देखने लगा फिर उसने नान भाई से बात की और आकर चौथी कुर्सी पर बैठ गया दुकान की चौड़ाई ही चौड़ाई थी जिसके मुंह पर एक जानब नान भाई अपने देश के थालियाँ और दूसरी अशिया लिए बैठा था और दूसरी तरफ तनूर था पीछे तंग सी मुस्ततील फर्श पे लकड़ी की छह बेरोगन मेज़ें और कुर्सियाँ एक दूसरी से लगा खाती हुई रखी थीं के मालूम होता था जैसे भीड़ लगी है सिर्फ दो मेज़ों पे गाहक बैठे हुए थे एक पे दो और दूसरी के गिर तीन मैले मैले कपड़ों वाले उधेड़ उमर मर्द जो शबाहत से मजदूर मालूम होते थे जीरे ने मैली टाकी से रगड़ रगड़ कर मेज़ साफ़ की थी मगर उसकी सतह पर चिकनाई की मुस्तकिल तय चढ़ी थी जो किसी तौर पर उतरती ना थी इसमें से बासी सालन की बू आ रही थी गरम गरम रोटियां लगा भई नान भाई ने दुबले पतले तनोरची को जिसके चेहरे पर धुएं की स्या राख जमी थी हिदायत की चंद मिनट में जीरा चने की दाल की चार प्लेटें लेकर आ गया उन्हें मेज़ रख रखकर वो वापस गया और सालन की चार प्लेटों की तश्तरी उठाए लाया सलीम ने झुककर अपनी प्लेट का मुआयना किया ये क्या है उसने पूछा ऐनक ऐनक ऐनक अहमद शाह और ग़ुलाम हुसैन ने एक साथ गिरदान की ये मजाक उस वक्त से था जब सलीम पहले पहल की उनके साथ शामिल हुआ था वो अपनी ऐनक इधर उधर रखकर भूल जाया करता था और ढूंढते हुए ऐनक ऐनक की रट लगानी शुरू कर देता था दुकान में दो लालटेनें जल रही थीं एक नानबाई के सर पे और दूसरी मेज़ों कुर्सियों वाली जगह पे दीवार से लटक रही थी जिनसे छूटती हुई मट्टी के तेल की बू दुकान में फैली थी सलीम ने जेब से ऐनक निकाली और आंखों पे अटकाकर मध्यम रोशनी में सालन की प्लेट को गौर से देखने लगा मगर जैसे ही वो प्लेट पर झुका एकदम सीधा होकर बैठ गया आ वो चेहरा छत की जानिब उठाकर इन दो नाक आवाज़ में बोला ओजरी अहमद शाह ने कह कहा लगाया खाकर तो देख जहर खा लूँगा ये नहीं खाऊंगा सलीम ने कहा ओए पेंडू दूर दूर से लोग इसे खाने के लिए यहाँ आते हैं हाँ हाँ पेशावर से आते हैं गुलाम हुसैन बोला जितने तप्पे इसकी मुखालफत में मैंने अपनी माँ से खाए हैं तुझे पता चले तो तू रोने लग पड़े तीनों लड़के हंसने लगे सलीम ने ओजरी के सालन की प्लेट अहमद शाह की तरफ खिसका दी ये ले तू इसे खा चख लेता हूँ मगर फिर ना कहना मेज़ पर कह क्यों कर दी है छोड़ यार सरफराज नागवारी से अहमद शाह को मुखातिब करके बोला नहीं खाता तो ना खाए हमारा क्या जाता है तीनों लड़कों ने तशवीश से सरफराज को देखा तुझे आज क्या तकलीफ़ हो रही है गुलाम हुसैन ने कहा खाना सामने रखकर ऐसी बातें सुनने का तुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा सरफराज बोला नान बाई का लड़का जीरा गरम गरम रोटियां ले आया चलो यार मज़ा ख़राब ना करो बिस्मिल्लाह करो मैं आपको अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ सलीम बोला ये हमारे कसाई और रोजरी की कहानी है वो चुप हो रहा बोल बोल क्या कहानी है मुख्तसर कहानी है यानी शॉर्ट स्टोरी सुना ना वो ओजरी से पसीना पहुँचा करता था सलीम ने कहा फिर बस ये शॉर्ट स्टोरी है किसी ने हंसने की ज़रूरत महसूस ना की सब रोटी तोड़ तोड़ कर खाने में मसरूफ़ थे दो सफ़ेद पोश किस्म के आदमी दुकान में दाखिल हुए आओ आओ बाऊजी आओ जी आया नू बैठो नान भाई ने कहा ओए जीरे दोनों आदमी आकर एक मेज़ के गिर्द आमने सामने बैठ गए और नान भाई के लड़के से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे बाकी तीनों मेज़ों से जबड़ों की चपचप की आवाज़ उठ रही थी ये फरिश्ते का क्या किस्सा है अहमद शाह ने खाते खाते पूछा कौन सा फरिश्ते का कौन से फरिश्ते का बाजवा ने कहा था हाँ सलीम ने जवाब दिया कहता था हमें यकीन से बताया गया था कि बम्बों से डरने की ज़रूरत नहीं दुश्मन के बम कोई ज़रर ना पहुंचा सकेंगे आसमान से सब्ज कपड़ों में मलबूस फरिश्ते आएंगे और हिंदुओं के बमों को हवा में ही पकड़कर दरिया में गिरा देंगे कहता है वहाँ ना कोई फरिश्ता था ना फरिश्ते की हवा बमों और तोपों के धमाकों से उनका पेशाब खुश्क हो गया था अहमद शाह आहिस्ता से हंसा भला जैसे फरिश्तों को बम उठाने के सिवा और कोई काम नहीं गुलाम हुसैन ने कहा क्यों नहीं सरफराज तेज़ी से बोला खुदा की मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है फिर फरिश्ते बम पकड़ने को क्यों नहीं आए सलीम ने पूछा आए होंगे सरफराज ने कहा क्या ज़रूरी है कि दिखाई दें उनको जितने बमों का हुक्म था वो पकड़ लिए बाकी के छोड़ दिए तो गोया ये फरिश्तों की खुफिया पुलिस थी जो दिखाई नहीं देते सलीम बोला जो लोग डर कर मैदान से भाग आए हैं उन्हें बातें करने का कोई हक नहीं सरफराज के तेवर देखकर अहमद शाह ने दोनों लड़कों को आंख का इशारा किया तो सब बात छोड़कर खाने पर तवज्जा देने लगे अचानक ब्लैक आउट के खात्मे का सायरन बाज उठा आहा हा हा लड़कों की मेज से खुशी का नारा बुलंद हुआ वो जीरिया नान भाई ने मुख्तसर सी ताली बजाकर आवाज़ दी पर्दा उठा दे जीरे और तंदूरची ने दोनों बाजू पर लटकी हुई रस्सियां पकड़कर खींची तो पर्दा दोहरा होकर उठता चला गया चाचा तरपाल पे बड़ा खर्चा आया होगा सफ़ेद पोशों में से एक ने नवाला चबाते हुए कहा नहीं बाऊजी ये तो पंद्रह साल पहले की है रमज़ान शरीफ के महीने के लिए ली थी अब ब्लैक आउट के काम भी आ जाती है चाचा बर्फ़ तो कुछ और भेज अहमद शाह ने पानी के आईने जग को हाथ से महसूस करके कहा बर्फ़ तो ख़त्म है जी बर्फ़ खाने वालों ने कोटा आधा कर दिया है इस जंग ने सारा निज़ाम ख़राब कर दिया हुआ है अल्लाह हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करे चारों ने प्लेटें साफ़ करके पानी के गिलास चढ़ाए और इतमान से डकार लिए अहमद शाह और गुलाम हुसैन ने अपने अपने सिगरेट सुलगाए वो बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि बरकी रो पलट आई अब उनकी मेज़ से दोबारा फ़तेह का नारा बुलंद हुआ आहा हा हा हा दुकान छोड़ने से पहले अहमद शाह ने खाने पीने के पैसे अदा किए गली में निकलकर सलीम ने पूछा कितना बिल बना सच बोलूं या झूठ सच यार सच हमेशा नुकसान देता है मगर खैर जंग का ज़माना है झूठ नहीं बोलना चाहिए दो रुपये दस आने किस हिसाब से चार चार आने की दाल छः छः आने की ओजरी दवन्नी मैंने जीरे को दी है हमेशा देता हूँ और रोटियाँ रोटियाँ मुफ्त हैं रोटियाँ मुफ्त इसलिए भाजी के पैसे ज़्यादा लेता है बाकी पैसे निकालो कौन से बाकी पैसे पौने दो रुपये वो मेरी कमीशन है वो एक कमीशन का लगता सरफराज बोला वो मेरी सिगरेट की डब्बी के पैसे अहमद शाह की बात ख़त्म होने से पहले तीनों लड़के उस पर टूट पड़े वो एक कमीशन का लगता सरफराज बोला वो मेरी सिगरेट की डब्बी के पैसे हैं अहमद शाह की बात ख़त्म होने से पहले तीनों लड़के उस पर टूट पड़े उसने लड़कों की गिरफ्त से निकलकर भागने की कोशिश की मगर लड़कों ने उसे घेर कर दबोच लिया अहमद शाह ने अपनी कमीज़ की जेब को दोनों हाथों से ढांपा और पाँव के बल ज़मीन पर बैठकर सर को कोहनियों और घुटनों के बीच छुपा लिया ऊपर से तीनों लड़के उसकी कलाइयाँ खींच खींच कर जेब उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगे फिर गुलाम हुसैन ने उसकी कमर को बाजुओं के हल्के में कसा और घसीट कर उसे ज़मीन पर लेटाना चाहा मगर अहमद शाह जो हर एक को तंजिया तौर पे पेंडू के लकब से पुकारता था खुद एक खालिस और तनोमंद किसान था जिस्मानी तौर पे वो अपने तीनों साथियों से ज़्यादा जोरावर था इसीलिए जब कॉलेज के पहले साल में उन चारों की आपस में दोस्ती हुई थी तो अहमद शाह को अनकहे तौर पर लीडर तस्लीम कर लिया गया था जब साल के अख्ताम पे हॉस्टल की ज़िंदगी और उसके जबतों से तंग आए हुए लड़कों ने मशवरा किया तो प्राइवेट कमरा लेकर रहने की तजवीज़ भी अहमद शाह ने ही पेश की थी वो अक्सर बाकियों से छोटी मोटी रकूम की मुफ्तखोरी किया करता था और कमाल सीना जोरी से करता था मगर इसमें दोस्ती का हक भी शामिल होता था दूसरे भी उसके हक को कबूल करते थे क्योंकि कॉलेज की ज़िंदगी की छोटी बड़ी चपकलिशों के अंदर अहमद शाह उनके आगे ढाल बनकर खड़ा हो जाता था इसी वजह से कॉलेज में कोई उन पर हार डालने की जरूरत ना करता था अहमद शाह ने जब उन तीनों का इकट्ठा बोझ अपने ऊपर महसूस किया तो फिर उसने इस खेल को ख़त्म करने की ठानी एक ज़ोरदार पछाड़ के साथ वो कूद कर उनके चुंगल से निकल कर भागा तीनों लड़के बेदिली से उसके पीछे दौड़ पड़े गली की नुक्कड़ पर उन्होंने अहमद शाह को जा लिया चंद मिनट तक मजीद दिखावे की हाथापाई हुई फिर सब सब सूरत हाल को तस्लीम करके घर के रास्ते पर चल पड़े उनके ए के इम्तहान चार माह पहले ख़त्म हो चुके थे मगर नतीजा अभी ना निकला था प्रोग्राम के मुताबिक वो तीसरे साल में मशरूत दाखला लेने के लिए कॉलेज आए थे कि जंग छिड़ गई रवानगी के वक्त वो कमरा छोड़ गए थे खुशकिस्मती से उनकी वापसी पर कमरा अभी खाली था कॉलेज एक दिन के लिए खुलकर गैर मुन अरसे के लिए बंद हो चुके थे चुनाचे उन्होंने वापस अपने अपने कमरों को जाने का फैसला कर लिया था कमरे में दाखिल होते ही चारों लड़के जूतों समेत अपने अपने बिस्तर पर गिर पड़े इर्द गिर्द के कोठों पे लोग हवाई जंग का नज़ारा करने की उम्मीद से मायूस होकर नीचे उतर रहे थे एक खुशकुन शाम के अख्ताम पे लड़कों के अज़ा में खुशगवार थकन का एहसास था और दिल में बिछड़ जाने की हल्की उदासी थी अहमद शाह ने हाथ बढ़ाकर रेडियो का बैटरी वाला बटन निकाला और बिजली वाला दबा दिया कौमी तराने बज रहे थे गुलाम हुसैन ने करवट लेकर कहा नींद आई है ना सरफराज ने कहा अभी नूर जहाँ आएगी नूर जहाँ को सुन सुनकर अभी तेरा शौक पूरा नहीं हुआ मेरे तो कान पक गए हैं दो हफ्ते हो गए हैं कोई काम का गाना नहीं सुना दिन रात यही हु हा लगी रहती है तू कानों पर चादर लपेट कर सो जा सरफराज ने कहा भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फ़ायदा टर टर ना कर अभी तुझे बताता हूँ भैंस हूँ कि भैंसा ओए वाह उठने की तेरे अंदर हिम्मत नहीं और बातें बढ़ बढ़ के करता है पेंडू जूते तो उतार कर सो अहमद शाह बीच में बोला यार क्या बकवास लगा रखी है तुम्हारी हर वक्त की तू तू मैं मैं कान खा गई है शाह यार रेडवे की आवाज़ नीची कर दे इन दोनों को सब्र आ जाए हाँ भाई आइंस्टाइन साहब को सोच विचार की मोहलत चाहिए सरफराज ने कहा शाह जी आइंस्टाइन फिज़िक्स का मामा हल कर रहा है गुलाम हुसैन बोला दो साल हो गए हैं अभी शुरू में ही अटका हुआ है अब वो दोनों अपनी लड़ाई छोड़कर सलीम के पीछे पड़ गए थे अहमद शाह ने हाथ बढ़ाकर रेडियो की आवाज़ कम कर दी एक सिगरेट तो दो शाहजी गुलाम हुसैन ने कहा अहमद शाह ने डब्बी से सिगरेट निकालकर सुलगाया और गुलाम हुसैन की जानब उछाल दिया गुलाम हुसैन ने जलता हुआ सिगरेट हाथों के प्याले में पकड़ा और तेज़ी से उठाकर उंगलियों में दबोच लिया फिर भी उसकी हथेली में एक जगह पे जलन उठ गई जिसे वो तकिए पर रगड़कर सहलाने लगा अहमद शाह ने अपने लिए दूसरा सिगरेट सुलगाया और कश लेने लगा कमरे में अब खामोशी थी कुछ देर के बाद गुलाम हुसैन ने कहा एक बात है शाहजी दाल थी बड़ी मज़ेदार मुझे तो उसकी ओजरी पसंद है अहमद शाह ने कहा रोटियां वाकई मुफ्त देता है हाँ पहले तीन आने की दाल और आने की रोटी देता था फिर दाल चार आने की कर दी और रोटियां मुफ्त जितनी भी खा लो वैसे दो से तीन खा लो तो मजाक मजाक में कह जाता है लगता है बाबूजी भूख रख कर नहीं खाते गुलाम हुसैन हंसा साथ ही उसने ओजरी भी शुरू कर दी अहमद शाह ने बात जारी रखी मुफ्त रोटियों के लालच में लोगों ने दो दो सालन खाने शुरू कर दिए होशियार आदमी है गुलाम हुसैन ने कहा सलीम दीवार की तरह मुंह करके लेटा खराटे लेने लगा था अहमद शाह और गुलाम हुसैन ने सिगरेट ख़त्म करके फर्श पर बुझाए तो अहमद शाह ने बिजली बुझा दी साथ ही रेडियो बंद कर दिया अब कमरे में तारीकी थी शाम गो खुश वक्ती पे ख़त्म हुई थी मगर मुस्तबिल के बारे में बेयकीनी की कैफियत सब पे तारी थी हिंदुस्तान की दुश्मनी और उसके रूबरू मजामत के जज्बात दिलों में मौजन थे आखिर असाब की थकावट उन पर गालिब आ गई और नींद ने उन्हें पनाह में ले लिया सिवाय एक सरफराज के सरफराज की आंखें यूं वाह थी जैसे कि उन्होंने नींद का मज़ा कभी चखा ही ना हो शुरू शाम से उसके दिल में एक नामालूम से गुस्से का उबाल था जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सर उठाता और फिर दब जाता था अब तारीकी होने पे वो पोश लावा तन्हा रह गया था और बिठाए ना बैठता था खुश्क आँखों के अकब में सिर्फ दो अक्स थे जंग और ओजरी जब उसने देखा कि सब सो चुके हैं और खराटों की आवाज़ें तीनों जानब से पैदा हो रही हैं तो सरफराज ने हसब आदत अपने अंदर ही अंदर बोलना शुरू कर दिया दो चार माह की बात नहीं दो चार बरस का किस्सा है मगर यूं जैसे एक ही वक्त में एक साथ मेरे सामने खड़ा है मुझे उसकी एक एक बात दिखाई दे रही है उस रात को जब ओजरी पकी थी और लाले ने अचार की मदद से रोटी खाई थी तो एक लंबे अरसे के बाद मैंने आखिर लाले को बीबी के साथ लेटे हुए देखा था आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी आसमान पर टटीरी बोलती जा रही थी लाले का बिस्तर खाली था मैंने आंखें मल कर देखा तो लाला बीबी के बिस्तर पे लेटा था और उसमें हल्की सी जुम्बिश थी मुझे पता चल गया कि दोनों जाग रहे हैं मैं उस वक्त आधी नींद में था मगर मुझे याद है कि मैं दोनों को साथ साथ लेटा हुआ देखकर खुश हो गया था क्योंकि काफ़ी अरसा पहले मुझे कुछ ऐसा फहम हुआ था कि बीबी और लाले को कुछ हो गया है लाला सारा सारा दिन बाहर फिरता रहता था और बीबी ने बचूंगड़ों को कोसना और मारना शुरू कर दिया था जब बीबी उनको मारती थी तो मैं उन्हें बाहर ले जाता था बचूंगड़ों को वक्त बे वक्त रोने की आदत पड़ गई थी जिस रोज़ बीबी ओजरी पकाती थी लाला मुंह बनाकर उठ जाता था फिर कभी कभी वह दूध का कटोरा पी लिया करता वरना खाए पिए बगैर बिस्तर पर कर सो जाया करता था बीबी ने उसका ध्यान करना छोड़ दिया था उस शाम को लाले ने मुंह तो बनाया मगर उठकर नहीं गया रोटी ख़त्म करके पीढ़ी पे बैठा बीबी को देखता रहा था मैंने ये भी देखा था कि जब वो घर में दाखिल हुआ तो सहन में रुक कर उसने एक बचूंगड़े को प्यार से हाथ लगाया था अगले रोज़ भी जब वो सवेर का निकला सपहर को घर आया तो उसका रंग जर था और कपड़े पसीने से भीगे हुए थे मगर उसके चेहरे पे एक अजीब खाली खाली सा इतमान था और मिजाज खुला हुआ था लाला दोनों बचूंगड़ों को गोद में लेकर देर तक उनके साथ खेलता रहा था उस रोज़ के बाद लाले ने घर से गायब रहना छोड़ दिया और ज़मीन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था साल के गुजरने का पता ही ना चला था उस साल की हर एक छोटी छोटी बात मुझे याद है मगर यूँ लगता है कि उस अरसे में दो ही बड़े वाकयात हुए थे मैंने आठवीं जमात का वजीफ़े का इम्तहान दिया था हमारे हेडमास्टर को मेरी पढ़ाई पर बड़ा मान था उसने खुद मुझसे कहा था कि वजीफ़ा लग गया तो स्कूल का नाम बन जाएगा लाले ने तीन महीने तक मुझे सारे मजमूनों की तैयारी कराई थी बीबी ने कहा नमाज पढ़कर दुआ मांगा करो मैं रोज़ रात को खाने के बाद मस्जिद में जाने और नमाज अदा करने लगा था वज़ू करने पर मुझे अपने बदन में अजीब सी यकजहती का एहसास होता जैसे जिसम के कुछ ढीले ढाले खड़खड़ाते हुए हिस्से एक दूसरे से जोड़कर खूब कस दिए गए हों नमाज पढ़ने के बाद मैं गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता और गिड़गिड़ाने के दौरान चेहरे पर रोती हुई शक्ल पैदा करने की कोशिश करता या अल्लाह मैं दिल में पुकारता अगर मेरा वजीफ़ा लग जाए तो मैं वादा करता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए तेरी मस्जिदों में नमाज बाजमात अदा करता और तेरी इबादत करता रहूँगा दुआ मांगने के दौरान अल्लाह मियाँ की लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाली शक्ल मेरी आंखों के सामने रहती जिसमें वो सर पे बड़ी सी सफ़ेद पगड़ी बांधे आसमान के वस्त में अपना चेहरा ज़मीन की जानब झुकाए मेरे हर कोल और फेल को ताक रहे होते थे पढ़ाई में सख्त मेहनत और लंबे लंबे सबक याद करने के बावजूद दिल में एक बेयकीनी सी रहती थी मगर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने के बाद दिल पे इतमान का पर्दा छा जाता था मैं मस्जिद से लौटता तो बीबी कहती अल्लाह तेरे लाले को भी हिदायत दे उसने तो कभी मस्जिद की शक्ल ही नहीं देखी बीबी सच कहती थी लाले ने मेरी होश में कभी नमाज ना पढ़ी थी सवाए नमाज जनाजा के जो खड़े खड़े ही पढ़ ली जाती थी कई जनाजों पर मैं लाले के साथ जाया करता था इस तरह मैंने ना कभी अब्बे को और ना चाचे को नमाज पढ़ते देखा था बीबी की बात सुनकर लाला हंस देता मैं अल्लाह के बंदों की मदद करता हूँ वो कहता ये भी सवाब का काम है लाला भी सच कहता था उसे मैंने कभी किसी छोटे बड़े शख्स के साथ सख्ती से पेश आते हुए ना देखा था जब ज़मीन ठेके पे थी तो ठेके वाले अपने दुखड़े सुनाकर ठेका कम करा लेते थे जब कुछ देर के लिए आधे पर मज़ारों के हवाले की तो उनकी तंग दस्ती की दास्तानें सुनकर लाला आधी से ज़्यादा जेंस उन्हें छोड़ देता था बीबी उससे झगड़ती थी और ज़मीन उससे लेकर चाचे के हाथ में देने की धमकियाँ देती रहती थी लाला हर दिल अजीज़ था अगर वो किसी शहर के स्कूल में होता तो उसके जाने पर हड़ताल हो जाती मगर गांव फिर गांव होता है वजीफ़े के इम्तहान से पहले मैं बाबे चिल्ले शाह के मज़ार पे गया जो हमारे गांव से आधे कोस के फासले पर था मज़ार की दीवारें संगे मरमर से सफ़ेद पत्थर की थीं जिन पर लोगों ने अपनी मन्नतें लिख लिख कर उन्हें भर दिया हुआ था मैंने भी एक कोने में खाली जगह ढूंढकर मोटे सिक्के वाली काली पेंसिल से अपनी मन्नत की तहरीर लिखी बाबा जी आपकी दुआ से मेरा वजीफ़ा लग गया तो मैं अपने पहले वजीफ़े की रकम से आपकी खिदमत में पाँच रुपये का चढ़ावा पेश करूँगा स्कूल से छुट्टी होने पर सीधा घर आने की बजाय मैं हर रोज़ मज़ार से होकर और अपनी लिखी हुई मन्नत को पढ़कर आता जिससे मेरे दिल को तसल्ली होती थी इम्तहान शहर के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल में मनक़द हुआ था मैंने पूरे पूरे पर्चे हल किए और घर आने पर लाले ने दोबारा मुझसे हल करवाए आखिरी पर्चे के दिन लाले ने ऐलान कर दिया था कि बस समझो कि अल्लाह के फजल से वजीफ़ा मिल गया नतीजा निकला तो मेरा वजीफ़ा दो नंबरों से रह गया नतीजा सुनने के बाद मैं घर से निकलकर अपनी ज़मीन को चला गया और एक खेत के किनारे देर तक बैठा रहा था मेरे दिल पे गम का बोझ था जब शाम पड़ गई तो लाला मुझे ढूंढता हुआ वहाँ आ निकला और मुझे उठाकर वापस ले गया वाह भाई वाह वो मेरी सुरख आंखों को देखकर बोला जवान आदमी हो रोने की क्या बात है अब मैट्रिक की तैयारी करो वो हंसा वजीफ़े की रकम भी ज़्यादा होगी मुझे खामोश देकर वो बोला तेरी तो सारी उम्र पड़ी है तुझे पता है वो चलता चलता रुक गया और मेरी ठोड़ी को हाथ से उठाकर बोला तेरी उम्र पाकिस्तान जितनी है जब तक पाकिस्तान रहेगा तू भी जवान रहेगा अब्बा तो मुझे थान टूट कहा करता था मैंने उससे कहा अब्बे की क्या बात है लाला हंसकर बोला तू अब्बे को नहीं जानता वो मजाक किया करता था लाले के साथ घर जाते हुए मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई मगर उस दिन के बाद ना मैं बाबे चिल्ले के मज़ार पर गया और ना ही मैंने मस्जिद का रुख किया बीबी कहती अल्लाह मियाँ को वजीफ़े लगने की रिश्वत देते थे ऐसी नमाज़ें कबूल नहीं होती लाला हंसकर कहता छोड़ इसका पीछा मेहनत करने दे नमाज़ों से क्या होता है आए कुफर का बोल मत बोल बीबी जवाब देती खुदा से डर मुझे हैरत हुआ करती थी कि बीबी खुद तो कभी नमाज नहीं पढ़ती मगर दूसरों को तलकीन करती रहती है एक बार मैंने पूछा था बीबी तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती तो पहले पशेमान और फिर गमजदा सी होकर बोली थी हम किस गिनती में हैं अल्लाह हमें बख्श देगा गाँव में सिर्फ चंद एक बूढ़े या वो गरीब बच्चे जिनके वालदेन ने उन्हें मस्जिद में दाखिल करा दिया था नमाज पढ़ा करते थे बाकी के लोगों को अपनी और ज़मीन और आसमान की बाहमी चपकलिशों से ही फुर्सत ना मिलती थी कुछ देर के बाद बात गई गुजरी हो गई मैंने फिर से पढ़ाई की मेहनत शुरू कर दी मेरा हौसला ना टूटा गो बचपन के तिकन की वो कैफियत फिर लौट कर ना आई मेरा दिल डगमगा गया था लाले ने आठ एकड़ ज़मीन तैयार करके अपने हाथ से कमाद की फसल बोई जिसमें मैंने भी बराबर का हाथ बटाया ये उस साल का दूसरा बड़ा वाक़ था कुछ ज़मीन हमारी मेहनत से लाइक हुई कुछ आसमान उस साल मेहरबान रहा फिर चाचे अहमद ने एक नंबर के गाढ़े रस वाले देसी कमाद का बीज हासिल करने में मदद की फसल ऐसी घनी चढ़ी कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर ना पड़ती थी और खेत में एक कदम चलना दुशवार था दूसरे गांव के ज़मींदार उस आठ एकड़ कमाद के फल को देखने के लिए आते थे एक एक गन्ना पोने के मुकाबले का मोटा और बांस की मानंद ऊंचा और वज़न में दोनों से भारी था चूसने पर उसके रस से शहर टपकती थी गांव के लड़के एक सिरे से दाखिल होकर दूसरे सिरे तक दौड़ के मुकाबले की शर्तें लगाते थे और जब दूसरी जानब नमोदार होते तो छुरी की धार की मानन तेज़ पत्तों के चीर उनके चेहरों और हाथों को लहूलुहान किए होते थे लाले को जब पता चला कि इस खेल से फसल का नुकसान हो रहा है तो उसने उन्हें सख्ती से मना कर दिया उन्हीं दिनों मलक जहांगीर की शुगर मिल का एक क्रैशर चालू हो गया उस मिल में मलक जहांगीर का तीसरा हिस्सा था जिसके पैसे उसने एक मुरबा कर अदा किए थे इंडस्ट्री मलक जहांगीर ने उंगली उठाकर कहा था जब मैं भी लाले के साथ उनसे मिलने के लिए गया था अब हमारी निजात इंडस्ट्री में है एजाज अयूब खान का जहन इंडस्ट्री की तरफ है क्या खबर कि कल को ये ज़मींदारों के साथ क्या करे खुद ये हरीपुर का रिसालदार या रिसालदार का बेटा या जो कुछ भी है ज़िम्मेदारी से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं हर तरफ असलाहत का शोर मचा हुआ है ना जाने किस वक्त ये मार्शल ला के ज़ोर पर ज़मींदारों का पत्ता ही साफ कर दे इसीलिए भाई अभी से दूर अंदेशी करनी पड़ेगी जिधर की हवा चले उधर को ही मुंह कर लो फासला जल्दी तय होता है क्यों क्या गलत कहता हूँ बिल्कुल नहीं लाले ने जवाब दिया बड़े पते की बात है दुनिया में आजकल सनती दौर है तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो इसी वास्ते तुम्हारे सामने खुलकर बात करता हूँ हमारा अपना तबका भी कोई फरिश्तों की नस्ल से नहीं है नकीर के फ़कीर हैं गले का कुर्ता फटता फट जाए मगर कदम बराबर ज़मीन हाथ से नहीं छोड़ते जब मैंने मुरबा बेचा तो तू जानता है अपनी ही बरादरी ने मेरी कितनी बदनामी की थी मगर दो साल में मैं दो मुरबे और ख़रीद लूँगा तो फिर उनकी शक्ल देखने वाली होगी आंखें खुली रह जाएंगी दुरुस्त कहा मलक जहांगीर लाले ने कहा इंग्लैंड और अमेरिका में जब सनतों का दौर दौरा हुआ तो इसके बाद वो सारी दुनिया के लीडर बन गए थे वाह भई एजाज तेरे साथ बात करके मज़ा आ जाता है सवेर से शाम तक अनपढ़ किसानों के साथ दिमाग खपा खपा के मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है मगर अब मेरी बात को गौर से सुन तेरा दिमाग तो सनत की बात तक खूब जाता है मगर मेरी दूरअंदेशी आगे तक पहुंचती है आपकी दूरंदेशी की क्या बात है भाई जहांगीर लाले ने कहा भाई ई ई मलक जहांगीर समझाने के अंदाज में बोला सनतें लगाना कोई आसान काम नहीं इनकी मुश्किलात भी तो साथ ही होती हैं अब कमी कमीन मज़ारे मिला जुला कर दो ढाई सौ जाने मेरे रिस्क पर पलती हैं इनमें से एक की भी मजाल नहीं कि मेरी बात के आगे ऊंच नीच करे मगर मिल में ये बात नहीं होती कोई मज़दूर हो या कारीगर कि किसी की रियाया नहीं होते आठ घंटे काम किया और घर की राह ली बेगार का तो तस्वुर ही ना करो ओवर टाइम की तकरार तनख्वाह का तकाजा फिर हकूमत की तरफ से सहूलतें साल के बाद छुट्टियाँ बीमारी की छुट्टियाँ डिस्पेंसरी बनाओ रेस्ट रूम बनाओ ये बनाओ वो बनाओ कोई थोड़े बखेड़े हैं कि फैक्ट्री चालू नहीं हुई और यूनियन बनाने की बातें हो रही हैं बाहर से शरपसंद लोग आकर लीडर बन जाते हैं समझ गए ना हाँ लाला बोला ये बातें तो साथ चलती ही हैं ज़मीन की बादशाहत कहाँ मिलती है तुम नहीं समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ मलक जहांगीर बोला ये लेबर यूनियन का किस्सा है भाई तुम्हें तो यूनियन वूनियन के किस्सों का अच्छी तरह इल्म है तजर्बा भी है इसी काम में तुमने मार खाई है अब इस ताल्लुक वास्ते को काम में लाने का वक्त है लाला खामोशी से जहांगीर को देखता रहा कहने का मकसद ये है भाई इजाज़ के लेबर के मामले में तुम्हारा असर व रसूख मेरे काम आ सकता है मैंने अपने हिस्सादारों को तसल्ली दे दी है तुम्हें पता है शेखुपुरा के आवान हैं अपनी बरादरी है मैं गैरों से भाईचारे का रवादार नहीं कारोबार का मामला है सो बातें होती हैं हमारा सबसे पहले ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने लोगों को जोड़ कर रखें एक वक्त में मलक हमीद तुम्हारे ऊपर हाथ डालने को फिरता था मैंने उससे कहलवा दिया ना ना बाहर आ जाओ हमारे घराने उठ खड़े हुए तो मैं उनसे अलग होकर नहीं चल सकता तो भाई एजाज एक दूसरे की मदद इमदाद से ही आगे बढ़ा जाता है तुमने कमाद लगाया है हम अव्वल नंबर रेट देकर उठाएंगे और अदायगी नकद और तुम्हें क्या चाहिए मैं नहीं कहता कि ये करो और वो करो सच पूछो तो मुझे इन बातों की कोई समझ ही नहीं तुम तजर्बाकार हो जो मुनासिब समझो करो मकसद ये है कि मिल चलती रहे मिल का पहला क्रशर चला तो वादे के मुताबिक मलिक जहांगीर ने एक किनाल छोड़कर आठों के आठ एकड़ गन्ना उठा लिया और पैसे एक महीने के वक्फे पर अदा कर दिए हमारे घर में पहली बार इतनी नकदी आई थी खुशी के रंग लाले और बीबी के चेहरों से जाहिर होने लगे थे लाले और बीबी ने शलवार कमीज़ों के छः छः सात सात सूट बनवाए मुझे भी तीन सूट मिले बचूंगड़ों के लिए नए कपड़े आए सबके लिए एक एक जोड़ा नई चप्पलों का बनवाया गया इसके अलावा बीबी ने चाचे अहमद के सारे कुनबे को कपड़ों और जूतों का एक एक जोड़ा भेजा जब बासा नया जोड़ा और पेशावरी चप्पल पहनकर मिलने आया तो उसके पैर ज़मीन पर ना पड़ते थे मेरा कद काट भी निकल रहा था मगर बासा तो ऐसा गबरू जवान निकला था कि उसका सर आसमान को छूता हुआ मालूम होता था गो अब भी मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर कम अज़ कम एक बार उसकी टांगों के बीच चली जाती थी और उसका डील डोल देखकर दिल में हैरत अंगेज के आलात आया करते थे गांव के दर्जी और मोची की नज़र में तो हमारी कदरों कीमत बढ़ गई थी दूसरे लोगों के रवैये में भी एहतराम की झलक आ गई थी यहाँ तक के कई लोग अब मुझको भी सरफराजे की बजाय बेतकल्लुफ़ी से चौधरी कहकर मुखातिब करने लगे थे कभी कभी जब बीबी बरसबील तस्करा कहती कि ये सब मलक जहांगीर की मेहरबानी की बदौलत हुआ है तो लाला खफा होकर कहता मेहरबानी कैसी क्या गन्ना उसने बेचा था जान तोड़ मेहनत उसने की थी हमारा गन्ना पूरी तहसील में अव्वल नंबर पर है गुड़ नहीं देखा रवा पाँच मिनट भी नहीं उबलती और कड़ा के अंदर जमने लगती है मेहरबानी मेहरबानी तो मैं उसके साथ कर रहा हूँ दो झगड़े अब तक निपटा चुका हूँ वरना ना मिल चलती ना किस्सा शुरू होता मज़दूर बेचारे अच्छे हैं अब तक मेरी इज्जत रख रहे हैं अपना ही भला कर रहे हो बीबी जवाब देती ना मिल चलती न कमात का मोल पड़ता गुड़ पका पका कर हाथ में क्या आता था ऊपर से चौबीस शेर चीनी रियायती भाव पे मिली वो अलग गुड़ पका कर हमारा गुजारा तो हो जाता लाला कहता मगर मिल ना चलती तो जहांगीर का कबाड़ा हो जाता अव्वल नंबर कमात का बीज तो अब्बे ने ही लाकर दिया था ना बीबी जवाब देती मैंने महसूस किया था कि ओजरी वाली रात के बाद जब लाले और बीबी का सलूक बहाल हुआ था उस वक्त से बीबी हर गलत सलत बात पर अपनी टांग ऊपर रखने की कोशिश करती थी और लाला आखिर में चुप हो रहता था मुझे ख्याल आता था कि लाले के दिल में कोई गुनाहगारी थी जिसका बीबी को पता चल गया था और वो उसका फ़ायदा उठा रही थी अगला साल सारे का सारा अच्छा गुजरा था सिवाय आखिर के दो महीनों के मैंने दसवीं के इम्तिहान के लिए दिल लगाकर मेहनत की थी लाले ने बीज के लिए एक किनाल कमाद खड़ा रख लिया था अगले साल हमने दस एकड़ कमाद बेचा और सिर्फ दो ढाई एकड़ घर की गंदम के वास्ते रख लिए बीज वाले केनाल में से बीबी ने जोर लगाकर दो चार मरले कमाद का गुड़ पकवा लिया था कितनी देर हो गई मुझे ताज़ा गुड़ खाए हुए दो साल गरम गरम अध जमे गुड़ को पिघले हुए मक्खन में डबोकर बाजरे की रोटी के साथ खाने का मज़ा आज भी मेरी ज़बान पर है गोया अभी अभी खा के बैठा हूँ गो दो साल से मैंने नहीं चखा अजीब बात है क्या सब लोग मेरी तरह वक्त के अंदर आगे पीछे फिरने की अहलियत रखते हैं जैसे कि गुजरी हुई उम्र सामने की उम्र और आने वाली उम्र की कोई मुकर्र जाए मकाम ही नहीं इसी साल के आखिर तक की दो खुशगवार बातें मुझे याद हैं एक खाने वाल का जलसा था अपना पैर अंदर रखो जहांगीर ने लाले से कहा था बड़ा मौका है भाषानी का जलसा है इसमें शरीक होना ज़रूरी है और कोशिश करो कि अगर लीडरों के साथ नहीं तो स्टेज के आसपास दिखाई देते रहो ऐसे छोटी सतह के लोगों पर असर व रसूख कायम होता है मेरे इम्तहान हो चुके थे ज़मीन भी उस दौरान में फारिग थी मैंने लाले के साथ जाने पर इसरार किया लाला मुगलपुरे की एक मजदूर यूनियन और कुछ किसान कमेटियों के नुमाइंदों के जत्थे में शामिल था हम बस पर सवार होकर खानेवाल पहुँचे थे इतना बड़ा जलसा मैंने पहली बार देखा था पहले पहल तो मेरा जी घबराने लगा था मगर कुछ ही देर के बाद हजूम का खुश मिजाज जोशो खरोश देखकर मुझे तसल्ली हो गई और जूँ जूँ वक्त गुजरता गया मैं मजमे में घुलता मिलता गया बीसियों ही मुख्तलिफ झंडे और बैनर छोटे छोटे भांसों पे बंधे हजूम के सिरों के ऊपर ऊपर लहरा रहे थे ज़्यादातर एन ए पी के बैनर थे मगर कई मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों के किसान और मजदूर तंजीमों के कतबे और परचम सारे मैदान पर ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे शादियों के मौके पर रंग बिरंगी झंडियों की कितारें लोगों की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद मज़ीद जुलूस आ आकर शामिल होते जा रहे थे हर एक जुलूस के साथ कम अज़ कम एक ढोलची ज़रूर होता था जिसकी थाप पे चंद लोग आगे आगे नाचते हुए ज़रूर आते थे बहुत बड़ा स्टेज था जिस पे 40-50 लोगों के बैठने की जगह थी गो सिर्फ दस बारह कुर्सियाँ रखी थी स्टेज के एक कोने पर थारों से भरा हुआ टोकरा रखा था माइक्रोफोन पर एक दस बारह साल का मजदूर लड़का खड़ा पंजाबी की इनकलाबी नज़म गा रहा था बड़े बड़े लीडरों की आमद की खबर थी भंडारा साहब मलक साहब इंसारी साहब शेख साहब मंगश साहब मगर सबसे ज़्यादा इश्तियाक मौलाना भाषानी के बारे में था मालूम होता था कि किसी ने भी उनको देख ना रखा था मेरे ख्याल में सिर्फ एक सूरत आती थी जिसका चेहरा मोहरा गायब था बस एक लंबी चौड़ी सफ़ेद दाढ़ी हर जानी फैली हुई दिखाई देती थी क्योंकि उनका नाम मौलाना था मैंने कुछ लोगों को चैम गोइयाँ करते हुए सुना था कि मौलाना भाषानी कम्युनिस्ट थे लाला कम्युनिस्ट क्या होते हैं मैंने पूछा रूस और चीन के रहने वालों को कम्युनिस्ट कहते हैं लाले ने मुख्तसरन जवाब दिया मेरी तसली ना हुई रूस और चीन के रहने वालों को तो रूसी और चीनी कहते हैं मैंने सोचा लाला मैंने पूछा मौलाना भाषानी कम्युनिस्ट हैं नहीं नहीं लाला सख्ती से बोला खिदमत खल करने वाले खुदा खौफ आदमी हैं बहुत बड़े लीडर हैं मेरा जहन मज़ीद गड़बड़ हो गया आज तक मुझे कम्युनिस्टों के बारे में पूरा इल्म हासिल नहीं हो सका सिर्फ इतना मज़ीद पता चला है कि कम्युनिस्ट ला मज़हब होते हैं कई बार इरादा किया है कि किसी इलम वाले से दरियाफ्त करूं, मगर मौका ही नहीं मिला मैं इन बे इल्मों के घरों में फंस गया हूँ यारों के यार हैं मगर एक नंबर के जाहिल हैं सारा सारा दिन और आधी रात तक खाते और बकबक करते रहते हैं और फिर बिस्तर पर लंबे पड़कर सो जाते हैं मेरा ख्याल नहीं कि इनमें से एक भी इस दफ़ा पास हो एक मैं ही हूँ जिसे नींद आते आते ही आती है पिछले साल हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर मीर साहब के बारे में भी अफवाह थी कि कम्युनिस्ट हैं मगर मुझे तो वो बहुत अच्छे लगते थे शेक्सपियर का ड्रामा कराने की तैयारी कर रहे थे फिर अचानक उनकी तब्दीली हो गई कुछ लोग कहते थे उन्हें निकाल दिया गया है वल्ला आलम क्या किस्सा था लाला वो दो आदमी कह रहे थे मौलाना भाषानी कम्युनिस्ट हैं मैंने कहा झूठ बोलते हैं लाला बोला अफवाहें फैलाते हैं इंसान दोस्त होने से भला कोई कम्युनिस्ट हो जाता है सबसे पहले पंजाब और सरहद के लीडर आए मलक साहब और शेख साहब भट्टी साहब और कुलू साहब खान साहब और चिंगेज़ी साहब ये सब लीडर अपने अपने जुलूस लेकर आए थे नारों और ढोलों के शोर में जैसे जैसे ये लीडर आते गए टोकरे से दो दो चार चार हार उठाकर उनके गले में जो पहले ही हारों से लदे थे पहनाए जाते रहे स्टेज पर चढ़ते ही वो दोनों बाजू हवा में बुलंद करके हजूम के नारों का जवाब देते और कुर्सियों पर बैठ जाते फिर एक दूसरे की जानब झुक झुक कर बातें करते लोगों की रेल पेल कर खुशी से हंसते इंतज़ामिया के छोटे मोटे लोगों के साथ गैर मामूली इनकसारी से मुसाफे करते और कनातों के पिछले दरवाजे की जानब मुड़ मुड़ कर देखते मजमे में हलचल थी लोग नारे लगा लगा कर थक जाते तो एक जानब से तालियों की लहर उठती और चश्मे जदन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल जाती आखिर जब बच्चों की नज़मों और नौजवानों की इक्का दुक्का तकरीरों से मजमे की बेताबी ना संभली तो दिलदार भट्टी साहब जो इलाके की किसान तंजीम के सेक्रेटरी थे उठकर माइक्रोफोन पर आए उन्होंने हाथ बुलंद करके मजमे को खामोश करा लिया और अपनी तकरीर शुरू की लोग तकरीर सुनने लगे दिलदार भट्टी साहब अपनी तकरीरों के लिए मशहूर थे मगर मेरी हालत मुख्तलिफ थी ये मेरा पहला जलसा था मेरा ध्यान तकरीर की बजाय दूसरी चीज़ों पर था मैं अल्फाज की बजाय बोलने वाले की आवाज़ के जेरो बम को महसूस कर रहा था फिर मैं मुकर्र के बाजुओं उसके सर हाथों कंधों और सारे जिसम की जुम्बिश को देख रहा था एक बार मुझे ख्याल आया कि उसकी जगह पर अगर मैं खड़ा हूँ तो कैसा महसूस करूँ फिर मैंने लोगों के बेकरा हजूम पर नज़र दौड़ाई तो मेरा दिल लरजने लगा था स्टेज के अकब में लीडरों के दाखिल होने का जो रास्ता था इस पर भी मेरी नज़र थी मैं सर सैद अहमद ख़ान की तस्वीर से वाकिफ़ था आसमान पे अल्लाह ताला की जो तस्वीर मेरे जहन में थी वो सर सैयद अहमद ख़ान से मिलती जुलती थी इस रोज़ मैं अल्लाह मियाँ और सर सैयद के बीच बीच की शक्ल वाले मौलाना भशानी की आमद का मुंतज़र था फिर एक बार जो मेरे कान तकरीर की जानब रागिब हुए तो मैं सुनता ही चला गया ये कौन लोग हैं दिलदार भट्टी साहब हाथ हिला हिलाकर कह रहे थे जो हमारे इलाके की मतरूका ज़मीनों पर आकर काबिज़ हो गए हैं इन नाजायज़ कब्जा जात के ज़िम्मेदार कौन हैं मैं आपको बताता हूँ इस हक तलफी के ज़िम्मेदार वो हकूमती कारिंदे हैं जिन्होंने दूसरे ज़िलों से ही नहीं बल्कि दूसरे सूबों से लोगों को यहाँ लाकर आबाद किया है जिन्होंने जड़ा वाले की जेल चक्कू की जरखेज़ जरखेज़ सोना उगलने वाली ज़मीन बड़े बड़े इस्तहसाली ज़मींदारों को इनायत की है लेकिन जो मेहनत कश अपने खून और पसीने से ये सोना उगाते हैं वो कल भी गरीब किसान और खेत मजदूर थे आज भी गरीब किसान और खेत मजदूर हैं ये हकूमती कारिंदे कौन हैं जिन्होंने जाली महाजरों के लिए कानून बनाए हैं जिन्होंने कानून बनाया है कि दिल्ली और लखनऊ का रहने वाला सिर्फ एक हल्फिया बयान देकर छत्तीस हज़ार यूनिट अलाट करा सकता है मैं पूछता हूँ कि ये पाकिस्तान है या महाराजा रंजीत सिंह की हकूमत है जहाँ नौकर झूठे सच्चे बयान देकर मुरबों के मालिक बन गए हैं और शुरफा जिनकी हमियत उनके आगे आने में माया रही है वो नौकर बन चुके हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सरजमीन को हमेशा के लिए गंदे खून से दागदार कर दिया है मैं बताता हूँ कि ये कानून बनाने वाले रंजीत सिंह जैसे अनपढ़ नहीं हैं ये दिल्ली और अलीगढ़ के ग्रेजुएट हैं ये इन्हीं अंग्रेज़ों के कारिंदे हैं जिन्होंने कौम के गद्दारों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर सबसे पहले इस ज़मीन पर दाग लगाया था अब उनकी औलादें उमरा और शुरफा कहलाती हैं कोई उनसे पूछने वाला नहीं कि उनकी मलकियतों का मंबा कहाँ से फूटा था अब उन्हें नाम नहाद खान बहादुरों और नवाबों के वारिसों ने अपने हकूमती कारिंदों को पाल कर इस पाक सरजमीन पर गद्दारी की मजीद मोहरें सब कर दी है मैं भोज का खड़ा सुन रहा था उन अल्फाज ने मेरे कानों में सनसनाहट पैदा कर दी थी लाला भी घर में कभी कभी किसी बात पर जोश में आकर तकरीर के अंदाज में बात किया करता था मगर जो बातें भट्टी साहब के मुंह से निकल रही थी वो मैंने पहली बार सुनी थी भट्टी नर आदमी है मेरे साथ बैठे हुए आदमी ने कहा बात खुलेआम करता है अंदर खाने का आदमी नहीं है भट्टी साहब सांस लेने को रुके तो दूसरे आदमी ने मुंह के आगे हाथ रखकर फेफड़ों को पूरे जोर से बब बब हा बबला की जारहाना आवाज़ पैदा की जो हमले और फतेह की ललकार थी पंद्रह बरस की उम्र में मैंने खुलेआम ऐसी बातें सुनी थी जिनसे बगावत की बू आती थी और जिनका ख्याल करके ही दिल डर जाता था इस दिन पहले पहल मेरे जहन में गद्दारी और बगावत का रिश्ता उसवार हुआ था जैसे कि ये दोनों चीज़ें आपस में लाजिम मलजूम हों सिर्फ एक फ़र था मुझे खबर नहीं तो यह दिलदार भट्टी की बातों का नतीजा था या कि महज मेरी खाम ख्याली इसमें कार फरमा थी मगर मेरे दिल में यकीन पैदा हो गया था कि बगावत और गद्दारी दोनों के वही लोग मुर्तकब हुए थे जिनको दिलदार भट्टी साहब मलाउन कह रहे थे दिलदार भट्टी साहब की बातें मेरे दिल को अभी लगनी शुरू ही हुई थी कि स्टेज के पीछे हलचल पैदा हुई कई लोग भागते हुए दाखिल हुए फिर मज़ीद लोग दूसरों को सामने से हटाकर रास्ता साफ करते हुए आए उनके नरगे में एक छदरी दाढ़ी स्या रंगत और भारी जसे वाले शख्स नमोदार हुए दिलदार भट्टी ने मुड़कर देखा और गोया बीज मजदार अपनी तकरीर रोककर बाजू हवा में उठा दिए हज़रत मौलाना भाषानी साहब तशरीफ़ ले आए हैं वो बोले उनके इस्तकबाल के वास्ते हाजरीन खड़े हो जाएं। फिर दिलदार भट्टी चीख कर बोले मौलाना भाषानी जिंदाबाद जवाब में मजमा ने नारा लगाया ज़रा ज़ोर से दिलदार भट्टी दोहरा कर बोले मौलाना भाषानी जिंदाबाद गाजी बंगाल जिंदाबाद मुजाहिद इंसानियत जिंदाबाद नारों के बीच टोकरे के बाकी मांदा हार मौलाना भाषानी को पहना दिए गए मौलाना भाषानी को देखकर मुझे सख्त मायूसी हुई मैं नारों के जवाब में जिंदाबाद की गर्दान करता रहा और दिल में हैरत से सोचता रहा कि क्या ये मौलाना भाषानी है मेरे जहन से सर सैयद अहमद खान और अल्लाह मियाँ की मिली जुली सूरत आपसे आप गायब हो गई इस शख्स की ठोड़ी पे चंद बाल थे जिनमें तकरीबन आधे सफ़ेद और बाकी के मेहंदी लगे सुर्ख रंग के थे जिल्द जली हुई स्याह जिसम गुठा हुआ मजबूत और मोटा था लिबास के नाम की एक धारीदार कमीज़ और टखनों से ऊंची हल्की सी लुंगी थी पाँव में हवाई चप्पल और हाथ में लंबा सा लकड़ी का डंडा था पहली नज़र में ये आदमी पुलिया से कोई खेत मजदूर दिखाई देता था जो ज़यीफ़ुल उमरी की वजह से काम तर्क कर चुका हो सिर्फ इसकी चाल ढाल जो भारी भारी कदमों वाली थी और तौर तरीका जिससे वो स्टेज पे बैठे हुए लोगों से मिला था वो मुख्तलिफ थे उनमें एक पुरमाद सादगी थी जिससे मालूम होता था कि गोया सारी दुनिया इस आदमी की अपनी ही मलकियत में थी स्टेज पे बैठे हुए सब लीडर एहतरामन झुक झुक कर मौलाना भशानी से मिले मौलाना भशानी ने सीधा खड़े खड़े अपने हाथ यूं बेतकल्लुफ़ी से आगे बढ़ाए जैसे हाथ नहीं बल्कि अपने आप को पेश कर रहे हों उनके इस अंदाज से मेरे अंदर एक लहर सी दौड़ गई पहली बार मुझे इंसान की गैर मरई ताकत का एहसास हुआ मैं स्टेज से कुछ फासले पर खड़ा था मौलाना भाषानी ने लुंगी इतनी ऊंची बांध रखी थी कि टखनों से ऊपर छः छः उंगल उनकी स्या मकदरों की सी पिंडलियाँ दिखाई दे रही थीं मुझे ऐसे लगा जैसे वो पिंडलियाँ मेरी आंखों के बिल्कुल करीब आ गई हैं और मैंने देखा कि उनकी मोटी झील पर तड़कने की वजह से सफ़ेद सफ़ेद बारीक लकीरों का जाल बना था स्टेज के दरमियान वाली कुर्सी पर बैठकर उन्होंने हारों की लड़ियाँ गले से उतारकर मेज़ पर ढेर कर दी और हाथ उठा उठाकर हजूम के नारों का जवाब दिया इस वक्त मैंने ये भी महसूस किया कि एक आदमी के हाथ उठाने और दूसरे आदमी के हाथ उठाकर जवाब देने में क्या फ़र्क था एक लीडर हाथ उठाता था तो अपने आप को दिखाता हुआ मालूम होता था दूसरा लीडर हाथ बुलंद करता था तो यूं लगता था जैसे अपने सामने खड़े हज़ारों लोगों के वजूद का इकरार कर रहा है मौलाना भशानी के हाथ एक एक फ़र्द को छूते हुए मालूम होते थे खुद मेरे दिल के अंदर इस लम्स को महसूस करके ऐसा जोश उभरा कि मैंने गला फाड़ कर अपने तई दिन भर का सबसे ऊंचा नारा लगाया मेरी आवाज़ फट गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल के गिरदा गिर्द एक मजबूत हिसार बन गया हो जो इसे हर किसी यलगार से महफूज रखेगा अब इलाके के मकामी और उनके बाद बाहर से आए हुए बड़े लीडरों की तकरीरें शुरू हुई दिलदार भट्टी साहब की तकरीर के बाद मेरी तो तेज़ हो चुकी थी उनके अल्फाज दिल में खौफ पैदा करते थे मगर साथ ही ऐसे पुरकशिश भी थे कि मज़ीद सुनने को जी करता था मगर बाद में आने वाले लीडरों की तकरीरें सुनकर मैं मायूस होता गया उनके अल्फाज में ना भट्टी साहब के लहजे की काट थी ना उनके अल्फाज की ख़तरनाक ललकार ये लीडर बोल तो जोश से रहे थे मगर धीमे महजब अंदाज में गरीबों और मेहनत कशों के हकूक़ जमहूरीत और दीगर मौजूद पर बात कर रहे थे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनकी बातों में मेरी दिलचस्पी ख़त्म होती गई मैंने गैर इरादी तौर पे सुनना तर्क कर दिया यहाँ तक के बीच बीच के नारों के जवाब में भी मैं महज ओंठ हिलाने पर इतफ़ा करने लगा मेरी तमाम तर तवज्जा मौलाना भाषानी पर मरकूज़ थी जो कुर्सी पे सीधी पुश्त से बैठे बगौर दूसरों की तकरीरें सुन रहे थे किसी ने उनके हाथ में एन ए पी का झंडा पकड़ा दिया था जिसे कुछ देर तक तो वो पकड़े बैठे रहे फिर मफलर की तरह गले के गिर्द लपेट लिया लोग तकरीर करने वाले की बात काट कर नारे लगाने लगे जिनके जवाब में मौलाना भाषानी ने हंस हंस कर हाथ हवा में लहराए आखिर में जब मौलाना भाषानी की अपनी बारी आई तो नारों तालियों और ढोलों के शोर में वो उठकर माइक्रोफोन पर आए इश्तियाक से मेरा दिल धक धक करने लगा मुझे ख्याल आया कि अभी उनके मुंह से शेर की धाड़ की सी आवाज़ बरामद होगी और तलवार की धार के से लहजे में उनके अल्फाज सीनों को चीर कर दिलों में उतरते चले जाएंगे यहाँ तक के लोगों के जहन से दिलदार भट्टी की आवाज़ महव हो जाएगी उस लम्हे में मुझे ये इल्म ना था कि मुझको पहले से भी बढ़कर मायूसी का सामना करना पड़ेगा जैसे ही उन्होंने बोलने के लिए मुंह खोला उनके हलक से पतली सी चीख निकलती हुई आवाज़ निकली ना शेर की धाड़ का सा लहजा ना ही बारबत अल्फाज वो कोई अजीब सी मिली जुली जबान बोल रहे थे मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की बीच बीच में कोई लफ्ज़ या जुमला समझ में आ रहा था इतने में हमारी जानब का लाउड स्पीकर बंद हो गया जिससे आवाज़ बिल्कुल ही रुक गई उसके बाद मेरा ध्यान उनकी तकरीर से हटकर उनके वजूद पर जा अटका गुफ्तार की दिक्कतों के बावजूद उनके अंदाज का सहर उसी तरह कायम था उनके चेहरे हाथों बाजुओं और कंधों की हरकत में एक सादा सी तोानाई और ख़ुद मुख्तारी थी जो यक बारगी चौंका देने की बजाय गैर महसूस तौर पर दिलों में असर करती थी इस बात का मुकम्मल एहसास उस वक्त हुआ जब अचानक मेरी तवज्जा अपने इर्द गिर्द पे गई इतने बड़े मजमे पर खामोशी तारी थी लोग खिलाफ मामूल मौलाना भशानी की बात के बीच नारे लगाने से भी रुके हुए थे उनकी समझ में कोई बात आ रही थी या नहीं इससे उन्हें कोई गर्ज ना थी हम सब हमातन गोश होकर उस शख्स की आवाज़ को सुन रहे थे जिनके गर्द आलूद स्याह पैर और मोटी पिंडलियाँ स्टेज के फर्श में मजबूत किल्लों की मानंद गड़ी थीं और जिसका वजूद एक ऐसे शजर की मानंद था जिस पे कई जानदारों का इन्हसार होता है मैं हजूम की धक्कम पेल में लाले से बिछड़ चुका था जलसे के खात्मे पर उसे तलाश करने में मुझे कुछ वक्त लगा लाले का मिजाज बिगड़ा हुआ था तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया था वो खफगी से बोला लाला इतने धक्के लग रहे थे मैंने कहा हम दोनों वहाँ से चल पड़े लाला कुछ देर के बाद मैंने पूछा तुम कहाँ बैठे थे मैं आगे स्टेज के पास बैठा था लाला तुमने मौलाना भाषानी की पिंडलियाँ देखी थीं हाँ लाले ने कहा क्यों पिंडलियों की क्या बात है उनकी जिल्द तिड़की हुई थी मैंने गौर नहीं किया उस पर बारीक बारीक लकीरों का जाल सा बना हुआ था मैंने कहा तुम भी अजीब अजीब चीज़ें देखते रहते हो लाला बोला मुझे यकीन आ गया कि स्टेज के इतना नज़दीक होने के बावजूद लाले को वो लकीरें नज़र नहीं आई थीं ये सोचकर कि मेरे कब्ज़े में एक ऐसी चीज़ है जो लाले के पास नहीं है मैं दिल में खुश हुआ जब हम वापसी की बस पर सवार हुए तो मैंने पूछा लाला मौलाना बशानी क्या कह रहे थे कह रहे थे किसानों मज़दूरों गरीब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए मिलता तो है मैंने कहा मेहनत करके रोज़ी कमाने वाले को कभी पूरा हक नहीं मिलता लाले ने जवाब दिया जो लोग हमारी ज़मीनों पर बिजाई कटाई का काम करते हैं उनको हम हिस्सा नहीं देते लाले ने अजीब तरह से मेरी जानब देखा उसकी पेशानी पर सोच का एक बल नमोदार हुआ भई सवाल मेहनताने का नहीं लाले ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया असल मामला बड़े ज़मींदारों और उन बेज़मीन किसानों का है जागीरदारों के पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है दूसरी तरफ ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मलकियत में एक इंच ज़मीन भी नहीं ये लोग मालकों की ज़मीन पर मेहनत ही नहीं करते बल्कि उनकी ज़र खरीद गुलामी करते हैं जागीरदार उनको अपनी रियाया के नाम से पुकारते हैं और अपने मवेशियों का सा बेगार का काम उनसे लेते हैं जैसे मलक जहांगीर है मैंने पूछा लाला जवाब देते देते एक लहजे को रुक गया मुझे फ़ौर ही अपने सवाल पर पशेमानी का एहसास हुआ मुझे इल्म था कि लाला के मलक जहांगीर के साथ अच्छे ताल्लुक थे मलक जहांगीर ने हमारी फसल उठाई थी और लाले की जेब में पैसे आए थे मलक जहांगीर इतना बड़ा जागीरदार नहीं लाला बोला थोड़ा बहुत रोशन ख्याल भी है उससे बहुत बड़े बड़े मालकान हैं जिन्होंने अपनी रियासतें बना रखी हैं जो अपनी कुल अराजी का दसवां हिस्सा भी जेर काश नहीं लाते क्यों मैंने पूछा उनकी उसी काश्त से ऐश की ज़िंदगी बसर हो जाती है तुझे पता है कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे ज़मींदार हैं जिनकी ज़मीन सैकड़ों मुरबों पर फैली हुई है सैकड़ों मुरबों मैंने आंखें फैला कर कहा हाँ हाँ मैं सैकड़ों मुरबों को अपने तस्वुर में भी ना ला सकता था वैसे भी मेरी दिलचस्पी इस गुफ्तु में अब ख़त्म होती जा रही थी लाला मैंने कहा मुझे तो दिलदार भट्टी साहब की तकरीर का मज़ा आया था हाँ लाला हंसकर बोला दिलदार इनकलाबी आदमी है मगर ऐसे लोगों से उनके अपने आदमी ही मतवशिश होते हैं लाला मतवशिश क्या होता है वाह लाला बोला इस साल वजीफ़े की उम्मीद लगा के बैठे हो और मतवशिश के मायने नहीं जानते मतवशिश वो शख्स होता है जिसे तशवीश लाक हो मैंने पूछना चाहा कि दिलदार बट्टी के बारे में उनके दोस्त कैसे मतवशिश हो सकते थे मगर मेरा दिल अब इन बातों से उठ गया था मेरे दिल में उस जलसे के बारे में अब सिर्फ दो ही अक्स बाकी रह गए थे एक दिलदार भट्टी की शोले की मानंद लपकती हुई तकरीर और दूसरा मौलाना भाषानी का मीनार का सबूत नतीजा निकला तो सिर्फ तीन नंबरों की गुंजाइश से मेरा वजीफ़ा लग गया मेहनत बारावर हुई बीबी ने शुक्राने के नफिल अदा किए लाले ने गुड़ वाले चावलों की देख पकवा कर बांटी मेरे पैर ज़मीन पे ना टिकते थे लाले ने पक्का इरादा कर रखा था कि वजीफ़ा लगे ना लगे मेरी तालीम जारी रहेगी हमारे गांव के अंदर लाले के बाद मैं पहला लड़का था जो शहर के कॉलेज में पढ़ाई करने की घर से जा रहा था इस बात का सबको पता था कि लाला जो इरादा कर लेता था दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर वो अपने कॉल से ना हटता था लाला नतीजा निकलने से पहले ही दो कॉलेजों से दाखिले के फॉर्म हासिल कर चुका था वजीफ़ा लगने के बाद अब मेरे वास्ते किसी भी कॉलेज में दाखिला लेना कोई मुश्किल काम ना था ये एक ऐसा वक्त था कि मेरी दुनिया के बदलने का इम्कान मेरी आंखों के सामने लहरा रहा था इस मौका पर मलक जहांगीर ने हमारे ऊपर अपना वार किया मलक जहांगीर की शुगर मिल को चालू हुए चौदह पंद्रह माह हो चुके थे जिसके दौरान मुतद बार लेबर के झगड़े उठे थे जिनको लाले ने अपने ताल्लुक वास्ते से ठंडा कर दिया था मलक जहांगीर मुझसे ख़तरनाक खेल खेल रहा है एक बार लाले ने घर में बात की थी मेरे ऊपर नाजायज़ बोझ डालता जा रहा है अपनी बरादरी है बीबी बोली थी कुछ हम उसके काम आए कुछ वो हमारे काम आए दुनिया के कारोबार इसी तरह चलते हैं हमारे हक में अच्छा है खुशी गमी में शरीक होता है अपने मतलब के लिए करता है लाले ने कहा था मिल लगने से पहले हम कहीं और रहते थे तब वो कहाँ था तुझे इन बातों का पता नहीं सकीना मज़दूर एक सादा और गरीब तबका है उनका एतबार एक बार किसी से उठ जाए तो फिर चाहे उल्टे लटक जाओ तो फिर चाहे उल्टे लटक जाओ वो किसी बात के फेर में नहीं आते बस आंखें खोल कर चलो सब काम दुरुस्त हो जाएगा बीबी ने कहा टाले के चेहरे पर तफक्र था महीने में एक आध बार मलक जहांगीर अपना आदमी भेजकर लाले को बुला लिया करता था हर बार जो लाला वहाँ से लौटता तो पहले से ज़्यादा फिक्रमंद होता था जिस रोज़ वो आखिरी बार वहाँ गया तो मिल में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी लाले की वापसी से पहले ही गांव में खबर पहुंच चुकी थी कि मजदूरों के हजूम पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और कुछ मजदूर जख्मी हो गए थे हमारे घर में अब्बास खबर लेकर पहुंचा था बीबी कभी अंदर जाती थी कभी बाहर कभी बैठती कभी उठ खड़ी होती अल्लाह करे झूठ हो वो बार बार कहती बासे तेरी खबर झूठ निकली तो चमड़ी उधेड़ दूंगी बीबी मौला जी उधर से खुद भाग कर आया है कौन मौला जहूर खैरा मलंगनी का खसम हाँ तो उसकी बात पर इतबार कर तू तो उसकी बात पर इतबार करके बैठा है वो अपनी माँ के पेट से झूठ बोलता हुआ पैदा हुआ था मैं क्या उसको जानती नहीं बीबी वो कुरान की कसम खाकर कहता है अब्बास ने कहा अल्लाह तेरे लाले को खैर खैर से घर लाए हम ये किस बखेड़े में फंस गए हैं गुड़ खा लेंगे या अल्लाह हमारे दिलों से लालच को निकाल मिल क्या लगी है हमारे ऊपर आफत आ गई है पहले भट्टे के झगड़े से छुड़ाकर खेती पर लगाया अब ये अल्लाह हमारी मिल लग गई है मलक जहांगीर अल्लाह तुझे हिदायत दे बीबी अपने आप से बातें करती हुई अंदर बाहर आती जाती रही लाला घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था अल्लाह खैर अल्लाह खैर बीबी भागकर उठी और लाले के बाजुओं कंधों और हाथों को टटोल टटोल कर देखने लगी खैर है ना चोट तो नहीं आई लाले ने आहिस्तगी से झटक कर अपना बदन उसके हाथों से अलग किया और चुपके से जाकर चारपाई पे बैठ गया लड़ाई हुई है बीबी ने पूछा लाला कुछ ना बोला पुलिस आई थी पुलिस ने लोगों को मारा है तुम कहाँ थे पुलिस के आगे तो नहीं आए वो सवाल पे सवाल किए जा रही थी और लाला मुंह बंद किए बैठा हुआ हवा में तके जा रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो आखिर बीबी हार कर उसके सामने से हटी और आवाज़ देकर बोली बासे एक मुर्गी पकड़कर हलाल कर मैं और अब्बास सेहन में मुर्गियों के पीछे भागने लगे हमारी देसी मुर्गियाँ मजबूत टांगों और पैरों वाली थीं और चाँ चाँ करके धूल उड़ाती और पंजे मारती हुई हाथों से निकली जाती थीं आखिर हमने घेर घा कर एक मुर्गी को काबू में कर लिया ओए सरफराजे बीबी बोली बासा तो पागल का टोटा है तेरी अकल भी पढ़ पढ़ कर मारी गई है ये अंडों वाली है वो काली मुर्गी पकड़ के ला चल हमारी अभी सांस भी बराबर ना हुई थी के हाथ वाली मुर्गी को फेंक कर काली के ताकुब में दौड़ पड़े सारी मुर्गियों ने शोर मचा मचा कर आसमान सर पर उठा रखा था मेरे तजर्बे में खुली मुर्गी पकड़ने का अमल दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है आदमी के बदन का कुदरती रब्त टूट फूट जाता है हाथ और पाँव इस अंदाज से हरकत करते हैं गोया उन पर इंसानी इरादे का जब्त ना हो ऊपर से काली मुर्गी उड़ान करके मुंडेर पर जा चढ़ी मैं दीवार के साथ खड़ी सीढ़ी पर चढ़कर बेहरकत खड़ा हो गया दूसरी तरफ से अब्बास उछल उछल कर उसे मेरी जानी भांकने लगा जैसे ही मुर्गी मेरी जद में आई मैंने हाथ मारकर उसकी टांग पकड़ ली मगर मुर्गी ने दूसरे पंजे का नाखून मेरी कलाई में गाड़ दिया साथ ही उसने इस जोर से पर फड़फड़ाए कि उसकी टांग मेरे हाथ से छूट गई मुर्गी फिर उडारी के जोर पे मुंडेर के ऊपर जा बैठी अब्बास पहले ही कोठे पर पहुंच चुका था मुर्गी उसे अपने करीब आते देखकर वापस सहन में कूद पड़ी बीबी सहन में खड़ी थी उसने दोनों हाथों से मुर्गी को हवा में उचक लिया हम सहन में पहुंचे तो बीबी मुर्गी के दोनों परों की जड़ों को गांठ की शक्ल में बांधे खड़ी थी बासे चूरी लेकर आ वो मुर्गी को मेरे हाथ में देते हुए बोली मेरी कलाई पर खून का एक कतरा उभर आया था बीबी ने झुककर उसे देखा खैर है वो बोली ज़रा सा नाखून लगा है चूल्हे से राख लेकर ऊपर मार ले अब्बास ने मुर्गी हलाल की बीबी ने लकड़ियाँ जलाकर कोयले बनाए जब लकड़ियों की पीली आग ख़त्म हुई और कोयले दहकने लगे तो बीबी ने मुर्गी की अधकटी गर्दन छुरी से काट कर फेंकी और पर नोच नोच के उतारे फिर उसने मुर्गी को कोयलों पे उलट पलट कर जिल्द की बारीक लुएँ को ख़त्म किया जिससे चमड़ी जलने से बची रही मगर किसी किसी जगह पे हल्की सी झुलस गई ये बीबी के हाथ का कमाल था हांडी में पककर यही झुलसी हुई उनाबी रंग की चटाखों वाली दानेदार चमड़ी असल मज़ा देती थी इस शहर में तो अब चमड़ी समेत मुर्गी पकाने का रिवाज ही ख़त्म हो गया है जहाँ देखो खुश्क नंगा गोश्त मिलता है जिसका सूफ दांतों के बीच अटक जाता है और धागा फेरे बगैर नहीं निकलता जो लुत्फ चिकनी चिकनी नरम खाल को चबाने का है वो मुर्गी की टांग में भी नहीं लाला और मैं दोनों चमड़ी के शौकीन हैं लाला साफ चमड़ी पसंद करता है जबकि उसके सुर्ख सुर्ख जले हिस्से मुझे अच्छे लगते हैं अब तो मैं चमड़ी वाली पकी हुई मुर्गी अपने घर जाकर ही खाता हूँ बीबी हमेशा मेरी खातिर मुर्गी पकाती है वो अमूमन मुर्गी की एक रान मुझे और एक लाले को प्लेट में डालकर देती है अगर बासा आया हुआ हो तो उसको पूछती है कि वो रान खाएगा या सीना बासा हमेशा मेरे हिस्से की रान मांग लेता है इस मौके पर लाला हमेशा सीना ले लेता है और अपने हिस्से की रान और बहुत सारी चमड़ी मुझे दे देता है ये अब की बात है जब मैं घर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ दो साल पहले की उस शाम की बात और थी बीबी ने मुर्गी की दोनों राने जिन पर गली हुई नरम और लचकदार चमड़ी के गिलाफ चढ़े थे लाले की प्लेट में डालकर उसके आगे रख दी लाले के चेहरे से मालूम होता था कि उसे खाने की ख्वाहिश नहीं है मगर जब बीबी ने उसे खाने को कहा तो वह दस्तरखान से हाथ साफ करके खाने लगा बीबी गरम गरम फुलके तवे से उतारकर उनको मक्खन की डली से तर करती हुई लाले के आगे रखती जा रही थी अब लाला इस तरह से खाता जा रहा था जैसे बहुत देर का भूखा हो अब्बास लाले की प्लेट में दोनों रानों को एक तार देखे जा रहा था बीबी की नज़र उस पर पड़ी तो बोली सबर कर नदीदे तुझे भी देती हूँ चल मुँह परे कर नज़र ना लगा उस शाम को लाले ने अपने खाने में शरीक करने के लिए हमसे एक लफ्ज़ ना कहा वो किसी और ही ख्याल में गर्क था बीबी ने उस वक्त तक हमें खाना ना दिया जब तक कि लाला रोटी ख़त्म करके पानी पीकर चार पाई पे लेट ना गया फिर बीबी ने हमें कटोरों में सालन और फुलके दिए और ख़ुद अपना खाना लेकर लाले के बराबर वाली चारपाई पे जा बैठी और बचूंगड़ों के साथ मिलकर खाने लगी कोई नुकसान तो नहीं हुआ बीबी ने पूछा एक मज़दूर ज़ख्मी हो गया है लाले ने कहा हाय अल्लाह ज़्यादा ज़ख्म तो नहीं आया बीबी ने पूछा सर पर लाठी लगी है जख्म गहरा लगता है अस्पताल ले गए हैं बच तो जाएगा ना बीबी तफक्र से बोली इसका इलम तो खुदा को है सर के ज़ख्म का किसे पता होता है अल्लाह रहम करे बीबी ने कहा मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा मालिक ज़्यादतियाँ करें तो मामला इस हद तक पहुँचना ही था तुम्हारी बात नहीं चल सकी मेरी बात कितने दिन तक चलती मेरा रसूख अब ख़त्म हो चुका है मेरा ताल्लुक अब जहांगीर से भी ख़त्म समझो ना ना ऐसा ना कहो बीबी बोली अपनी बरादरी है अच्छे बुरे वक्त में काम आने वाला आदमी है मैंने उसका साथ उस वक्त दिया है जब तक दे सकता था अगर मैं ना होता तो ये वक्त बहुत पहले आ चुका होता अब आगे मैं उसके साथ नहीं चल सकता क्यों क्या हुआ है बीबी ने पूछा जो कुछ वो कहता है वो मैं नहीं कर सकता लाले ने कहा क्या कहता है वो कहता है मैं उसके साथ मिलकर सरकारी यूनियन बनाऊं। इसमें क्या खराबी है देखो लाला उठकर बैठ गया और हाथ उठाकर समझाने के अंदाज में बोला यूनियन मज़दूरों के हकूक़ की हिफाजत के वास्ते होती है मालिकान ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की खातिर मज़दूरों को तनख्वाह कम देते हैं मज़दूर इकट्ठ करके काम बंद कर देने की धमकी देते हैं मालकों ने इसका तोड़ करने के लिए ये तरीका निकाला है अपने एतमादी लोगों के अहदेदार मुंतखब करा के अपने मतलब की यूनियन बना लेते हैं और उसे हकूमती दफ्तरों में दर्ज करा देते हैं तो इसमें क्या खराबी है सारे काम एतमादी लोगों के हाथ से ही होते हैं लाले ने अपने माथे पे हाथ मारा खुदा की बंदी खराबी ये है कि असली मज़दूरों के हाथ से उनका इख्तियार छीन कर अपने पट्ठों को उनके मुकाबले पर खड़ा कर देते हैं फिर उनसे अपनी मनमानी कराते हैं मिल तो चलती रहती है बीबी ने कहा चलती रहती है तो क्या हुआ काम चलता रहता है मज़दूरों का भी और हमारा भी तुझे बस पेट की ही फिक्र है या कुछ और भी कभी सोचती है लोगों के हकूक भी होते हैं सारी बात तो पेट की है रोटी और कपड़ा मिलता रहे तो अल्लाह का शुक्र करो ठीक है तुझे रोटी और कपड़ा मिलता है मगर साथ ही तेरा आदमी रोज़ तेरी हड्डियाँ भी तोड़ता है तो क्या तू मुतालबा ना करेगी कि तुझे मारा पीटा ना जाए करूँगी बीबी ने कहा मगर वो तो दूसरी बात है तो फिर ये दूसरी बात की ही बात है ये हकूक़ की बात है जुल्म के बहुत सारे रस्ते होते हैं मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती बीबी बोली पहले इन बातों में पढ़ के नुकसान उठा चुके हो तुझे समझ नहीं आती तो मैं क्या करूँ लाले ने गुस्से से कहा मुझे डर महसूस होने लगा था कि अब लड़ाई होने वाली है और बीबी भड़क उठेगी मगर उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई अब्बास भाग कर गया वापस आकर बोला मलक जहांगीर ने बंदा भेजा है लाला उठ कर गया बाहर निकल कर उसने दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर दिया दिल में वसवसा लिए हम तीनों सहन में बैठे दरवाजे को देखते रहे चंद मिनट के बाद लाला पलट आया और चारपाई पे बैठ गया कौन था बीबी ने पूछा जहांगीर का मुंशी था लाले ने कहा क्या कहता है लाला कुछ देर चुप रहा फिर बोला बुलावा भेजा था तो जाकर मिल लाओ अब मैं कोई सैर करता हुआ आया हूँ लाला बोला वहीं से आ रहा हूँ फिर क्या कहता है उसी बात पे मजबूर करता है क्यों पीछे पड़ा हुआ है उसके पास और कोई रास्ता नहीं दरअसल वो ज़िद में आ गया है इन लोगों की जहनीत ही ऐसी है ज़िद में आकर काम ख़राब कर देगा चलो वो इतनी तकरार कर रहा है तो इमदाद कर दो मैंने इनकार कर दिया है उसे समझ जाना चाहिए कि ये काम मुझसे ना होगा मैं अपनी ज़िंदगी भर की इज़्ज़त मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार नहीं ये असूल का मामला है बरदरी में इज़्ज़त का तुम्हें ख्याल नहीं देख सको लाला धीमे लहजे में बोला तुझे इन बातों की खबर नहीं ज़ात बरदरियाँ सिर्फ हम लोगों की होती हैं मज़दूरों में ना कोई जाट होता है ना आरई ना कोई सैयद ना कुरैशी ना चौधरी ना कमीन मज़दूरों की एक ही बरदरी होती है जो उनकी मेहनत पर कायम होती है इस मेहनत की कमाई उनका हक है ये लोग बरदरी के नाम पर वोट नहीं मांगते खाने के लिए रोटी मांगते हैं इस असूल पर मैंने अपनी उम्र लगाई है तुझे क्या खबर हाँ हाँ मुझे क्या खबर बीबी चिढ़ कर बोली तुम्हारे असूल हमारी बेड़ियों में बैठ गए हैं मैं तो कहती हूँ अपना भला पहले करो दूसरे का पीछे करो अब पेट भरकर खाने को मिला है तो शुक्र करो और ज़मीन पर नज़र रखो आसमान पर आंखें ना उठाओ मैं तो ये कहती हूँ तेरी तो समझ पीठ के पीछे लगी है लाला तेज़ी से बोला तेरे साथ बहस करने का क्या फ़ायदा ये कहकर लाले ने करवट ली और मुंह परे करके लेट गया बीबी देर तक खाने के बर्तन समेटती और मुंह में बुड़बुड़ाती रही सुबह जब मैं सोकर उठा तो सूरज निकला हुआ था और घर में खामोशी थी मैं बिस्तर से निकलकर सारे घर में फिरा मगर वहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात सिर्फ मुर्गियों का पिंजरा खुला था और मुर्गियाँ अपने सुबह सवेरे की सोई हुई आवाज़ों में कुड़कुड़ करती हुई सहन में दाना चुग रही थी बिस्तर सीधे भी ना किए गए थे यूं लगता था जैसे सब लोग बिस्तरों से निकलते ही बाहर चले गए थे मैंने जल्दी से नलके पर कुली की और पानी का घूंट पिया घर का दरवाज़ा चौपट खुला था मैंने गली में निकलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी गली खाली थी सिर्फ चंद बच्चे दीवार के साथ बैठे कंकरों से खेल रहे थे मैंने साथ वाले घरों में जाकर देखा तकरीबन सारे घर खाली थे मेरे दिल में एक मुहिब वसवसा पैदा हो चुका था मेरी अकल में ना आ रहा था कि ये क्या मामला है अब मैं क्या करूं किधर को जाऊं मुतद बार मैंने दाएं और फिर बाएं को देखा गली के बीचों बीच कीचड़ आलूद स्याह पानी की चौड़ी सी नाली बह रही थी जिसमें घरों से निकलती हुई पतली पतली नालियां आकर शामिल होती थीं मैं वहाँ खड़ा नाली में आहिस्ता आहिस्ता बहते हुए गंदे पानी को देखता रहा एक बच्चा किसी दरख्त की पतली सी शाख नाली में डबोए चल रहा था जिससे पानी की सतह बीच से जुदा हो होकर दोबारा यकचा होती जा रही थी तरेक के नीचे पीले पत्ते नाली में तैर रहे थे देखते ही देखते मुझे वो नाली एक चौड़े से खटे पटे साहिल वाले दरिया की शक्ल में दिखाई देने लगी कोई आदमी भी गली से ना गुजरा था जिससे मैं पूछता कि ये क्या किस्सा है आखिर मेरे कदम खुद ब खुद गाँव से बाहर की जानब उठने लगे जैसे कि किसी आवाज़ ने मुखातिब होकर कहा हो अपनी ज़मीन पर जा दूर से मुझे एक मजमा नज़र आया मेरे कदम तेज़ी से उठने लगे इतने में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ मैं जहाँ पे था वहीं रुक गया हमारी गन्ने की फसल कहाँ थी मैंने आंखें खोल खोल कर चारों तरफ देखा मुझे यकीन न आ रहा था कि सौ गज़ के फासले पर ये हमारी ज़मीन थी जहाँ पे लोग जमा थे मैंने अपने पाँव के नीचे ज़मीन को भी देखा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई पीछे मुड़कर गांव को देखा मुझे यकीन हो गया कि जिस जगह पे मैं खड़ा था ये वही जगह थी जिसे मैं पहचानता था तो मैंने दोबारा सामने देखा ये हमारी ही ज़मीन थी मगर हमारा कमात कहाँ गया था एक लहजे को यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई असेब साया किए हुए हो मेरे पाँव ज़मीन में गड़ते गए और मैं खड़े का खड़ा रह गया चंद लम्हों के बाद जाने बूझे बगैर मैं सरपट दौड़ने लगा फिर मैं किनारे पर खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर उस ज़मीन को देख रहा था जो कल रात तक गन्ने के खेत थे इस वक्त तीन एकड़ के रकबे की हमारी बेहतरीन फसल ज़मीन पे कुचली हुई पड़ी थी सारा गांव वहाँ जमा था मैं एक नज़र ज़मीन को और एक नज़र लोगों को देख रहा था चौधरी अल्लाह दाद मेरे बराबर खड़ा था उसने अपना बाजू मेरे कंधों के गिर्द रखकर गोया मुझे अपनी हिफाजत में ले लिया मगर मुंह से कुछ ना बोला सिर्फ तासुब से सर हिलाकर खामोश हो रहा लाला चार पांच आदमियों के झुरमट में खेत के किनारे अपना सर हाथों में लिए ज़मीन पर बैठा था बीबी उससे दो कदम परे चंद औरतों के साथ बैठी थी रहमत चौहान की बीवी मासी मरियम ने उसे कलाबे में ले रखा था बीबी हाथ से अपनी ओढ़नी को आंखों पे दबाए मासी मरियम के जिसम से टेक लगाए बैठी थी जैसे अपने बोझ को सहार ना सकती हो हसन और हुसैन तीन चार दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेत के अंदर गिरे हुए गन्नों को उठा उठा कर उनसे खेल रहे थे मैं जाकर लाले के पास बैठ गया मेरा जी चाहा कि चौधरी अल्लाह दाद की तरह मैं भी अपना बाजू उसके कंधों पर रख कर उसे अपनी हिफाजत में ले लूँ मगर मेरी हिम्मत ना हुई ना ही मेरी जरूरत हुई कि अपना मुंह खोलूं और पूछूं लाला ये क्या हुआ है उसी वक्त मैं अपनी दाई जानब से एक आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा खुदा तेरे जुल्म का बदला तुझे कब्र के अजाब से दे तुझे कभी चैन ना आए जालिम खूनी आवाज़ बीबी की थी मगर मैं उसकी जानब ना देखता तो मुझे पहचानने में दिक्कत होती आवाज़ हलक की बजाय पेट के अंदर से बरामद होती हुई मालूम होती थी बीबी आंखों से ओढ़नी हटाकर दोनों बाजू हवा में उठाए उस हैबतनाक आवाज़ में सदा दे रही थी मासी मरियम ने नरमी से बीबी के दोनों बाजू पकड़कर नीचे किए और उसका सर अपने सीने से लगा लिया खूनी बीबी ने आखिरी लफ्ज़ इस कड़ी सदा के तौर पर उगला कि मेरी नज़र के आगे वो हवा में जाकर अटक गया बीसियों लोगों के इस मजमे पर एक खामोशी का आलम तारी था जैसे कि वो सामने के मंजर की हकीकत का इल्म रखते हों मगर मुंह से ना बोल सकते थे मगर मुंह से बोल ना सकते हों लाले ने अपना सर हाथों से उठाया उसकी आंखें खुश्क मगर सुर्ख थीं मैंने सवालिया नज़रों से लाले को देखा मगर उसकी आंखें बच्चों पे लगी थीं जो ढही हुई फसल के बीच हंस हंस कर भाग रहे थे मेरी जानब देखे बगैर उसने एक हाथ मेरे सर पर रख दिया और चौकड़ी की हालत से उठकर पाँव के बल बैठ गया इर्द गिर्द के लोगों ने जैसे ही लाले में हरकत के आसार देखे आपस में बातें करने लगे बक्कू चूहा अपने खेत में सोया था किसी ने कहा ओए बरकत चौधरी अल्लाहदाद ने आवाज़ दी छोटे से मुंह वाला बक्कू दूसरी तरफ से उठ कर आया तू रात को अपने खेत में सोया था हाँ चौधरी वो खाट तेरी है चौधरी अल्लाहदाद ने एक किले के फासले पर चारे के खेत के किनारे पड़ी खाट की जानब इशारा करके पूछा हाँ चौधरी उधर ही पड़ी है एक कदम नहीं हिलाई खेस भी नहीं उठाया तफ्तीश में अल्लाह जाने क्या कुछ कहना पड़े बक्कू चूहा इस सारी हलचल के अंदर अपने आप को अहम जानकर तेज़ हो रहा था ओए तफ्तीश के पुत्र अल्लाह दाद ने कहा तू रात को इधर सोया था तुझे कुछ सुनाई नहीं दिया चौधरी बिलाल मसीह मोची बोला इसकी गांठ पर तोप चला दो तो इसे पता भी ना चले ये कानों से बिल्कुल जा चुका है ना चौधरी ना बक्कू दाएं कान पर हाथ रखकर बोला बस इसमें कुछ खराबी है खरलों के ब्याह पर एक गोला मेरे पास आकर फटा जिससे पर्दा ज़रा हिल गया है दूसरी तरफ से सारी बात सुन लेता हूँ तेरी बात सुन रहा हूँ कि नहीं चौधरी हाँ हाँ बोल मुझे कुरान की मार पड़े जो झूठ बोलूँ सारी रात ना ट्रैक्टर की आवाज़ ना डोज़र की मैं सुन लेता तो वो ये कब कर सकते थे तो क्या तेरे फरिश्ते आकर फसल हाथ से काट गए हैं अल्लाह दाद ने कहा बक्कू चूहे की बीवी अकब से निकलकर आगे बढ़ी चौधरी इस नाम मुराद को क्या पूछते हो इसकी आंख बंद हो जाए तो उसे अपनी धोती का भी होश नहीं रहता इरा वगैरह सब खोलकर नंगा पड़ा रहता है सारे जानते हैं पिछले साल इसकी धोती के डब से चोर नब्बे रुपये निकाल कर ले गए थे उसकी आंख बंद हो तो नामुराद मुर्दा है मुर्दा चाल लोए बढ़ बढ़ कर बोले जाता है वो बक्कू चूहे को अपने आगे आगे धक्के देती हुई वहाँ से निकाल कर ले गई लाला अपने सामने से एक टूटा हुआ गन्ना उठाकर बेख्याली से उस पर हाथ फेरने लगा जैसे बिजाई के लिए गांठों का इंतखब किया करता था फटे हुए गन्नों का रस बहकर जगह जगह पे ज़मीन में जजब हो चुका था जिससे खुश्क मट्टी में छोटे छोटे स्याह चटाक नज़र आ रहे थे हवा में गन्ने के रस और कमाद के खुरदुरे काटदार पत्तों की हल्की खुशबू फैली थी चौधरी अल्लाह दाद ने झुककर लाले के कंधे पर हाथ रखा और राजदारी से पूछा कोई कानूनी कार्रवाई लाले ने खामोशी से नफ़ी में सर हिलाकर बात ख़त्म कर दी फिर वो हाथ से गन्ने का टुकड़ा फेंक कर उठ खड़ा हुआ नरम नरम कदम धरते हुए गोया फूलों पे चल रहा हो वो खेत के अंदर बच्चों के पास पहुंचा, उन्हें दोनों बाजुओं में उठाया और वापस आकर बीबी के पास रुक गया इशारा पाकर बीबी उठ खड़ी हुई फिर लाले ने एक नज़र मेरी जानब देखा हम वापस घर को चल पड़े हमारे पीछे गाँव के सारे लोग एक एक करके वापस हुए चलते चलते मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा मुझे बीबी का पुंकारता हुआ लफ्ज़ अभी तक हवा में अटका हुआ दिखाई दिया जिसके किनारों से सुर्ख कतरों की फुहार निकल रही थी और नीचे खेत में कुचले हुए गन्ने मस्कशुदा लाशों की मानंद पड़े थे हम अभी गांव से बाहर ही थे कि अब्बास साइकिल के पीछे चाचे अहमद को बिठाए हुए आ पहुंचा हाय अब्बा बीबी ने फिर बाजू हवा में बुलंद किए और उससे लिपट गई चाचे अहमद ने बीबी को अपने बाजुओं के हल्के में संभाल लिया लाले ने उन पर निगाह डाली और बच्चों को उठाए उठाए चलता गया चाचा अहमद वहीं पर रुककर बीबी को दिलासा देता रहा मैं और अब्बास लाले के साथ घर वापस आ गए लाला बच्चे हमारे हवाले करके घर के अंदर चला गया सहन में धूप फैल चुकी थी हम चारपाई पे बैठे ही थे कि अंदर से लोहे पे लोहा लगने की मखसूस आवाज़ आई अब्बास और मैं दरवाजे पे जाकर खड़े हुए अंदर लाला अपनी बारह बोर की बंदूक तोड़कर दोबारा उसे जोड़ रहा था मेरा दिल खुशी से उछलने लगा उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तब तक मैं सदमे की हालत में था बंदूक को देकर मैं एकदम उस कैफियत से निकल आया गुस्से का एक लावा जो अंदर ही अंदर लहरें मार रहा था मेरे दिल को चढ़ने लगा असलहे की इस स्याह खामोश शक्ल में पोशीदा कुत और सर्द फौलाद में आग उगलने की अहलियत ने मेरे एहसास को जगा दिया था बंदूक की झलक ने मेरे अंदर ताकत का लालच पैदा कर दिया था मेरा खून जोश मार रहा था अब्बास भी मेरे साथ खड़ा इश्तियाक से बंदूक को देख रहा था लाले के चेहरे पर कोई तासुर ना था वो डब्बे से कारतूस निकाल रहा था कि बीबी और चाचा पहुंच गए बीबी ने सहन से एक बच्चे को गोद में उठा लिया दूसरा उसकी कमीज का दामन पकड़कर साथ साथ चलने लगा जैसे ही बीबी अंदर के दरवाजे पर पहुंची उसने दुहाई देनी शुरू कर दी अब्बा अब्बा इसे पकड़ हाय ये किसी का खून कर देगा अब्बा चाचा अहमद उसे सामने से हटाकर अंदर दाखिल हुआ उसने आगे बढ़कर लाले के हाथ से बंदूक ले ली लाले ने बंदूक बेमजामत उसके हवाले कर दी हम बदला लेंगे जाज चाचे ने कहा सोच समझ कर स्कीम बनाकर ये जल्दबाजी का काम नहीं बदले की बात नहीं चाचा मैं इसे साफ कर रहा था लाला बोला फसल पर जाकर सोऊंगा ठीक है मैं भी तेरे साथ सोऊंगा ओए चाचे ने मुझे और अब्बास को मुखातिब करके कहा शामो शाम बिस्तरे और चारपाइयाँ उधर ले जाना कहीं निकल ना जाना सुन लिया हाँ चाचा इधर उधर निकल गए तो चमड़ी अलग कर दूंगा नहीं चाचा मैंने जवाब दिया हम सब सहन में दीवार के साय के अंदर चार पाइयों पे बैठे थे कुछ देर के बाद साई चल्ला ब्यासी से फिरता फिराता हुआ आ पहुंचा उसने कमाद गिराने वालों को दो चार गलीज गालियां दी और हुक्का ताज़ा करने लग गया गांव के इक्का दुक्का लोग आते और जाते रहे वो कुछ देर बैठते हुक्के के दो कश लगाते और अफसोस से सर हिलाते हुए रुखसत हो जाते उनके वतीरे से जाहिर होता था जैसे कह रहे हों कि ज़बरदस्तों से लड़ाई मोल लेने का नतीजा अच्छा नहीं निकलता मेरा गुस्सा उबल रहा था मैं और अब्बास अलग चारपाई पे बैठे थे मेरे हाथ में बंदूक आ जाए तो सारों को भून दूँ अब्बास ने कहा हाँ मैंने जवाब दिया चल वो बोला बंदूक निकाल कर ले चलें कैसे निकालें अभी अब्बा और लाला इधर उधर होंगे तो निकाल लेंगे हम नीची आवाज़ में बातें कर रहे थे मगर हमारी गुफ्तगु चाचे के कान में जा पड़ी क्या बोल रहे हो उसने सख्ती से पूछा कुछ नहीं अब्बा अब्बास ने जवाब दिया गाय टकराने लगी लाला अपनी जगह पर बैठा रहा बासे चाचे ने हुक्म दिया चल उठ कर धारे निकाल सुनता नहीं बेजबान जानवर तकलीफ में है पहले ही दो घंटे देर हो गई है अब्बास ने उठकर बाल्टी में दूध धोया बीबी ने देचका चूल्हे पर रखकर दूध को एक उबाला दिया और बच्चों को पिलाया मगर बीबी ने अपने खाने पीने को चूल्हे पर कुछ भी ना चढ़ाया साईं चल्ला बार बार चूल्हे की जानब देख रहा था इतने में मासी मरियम ने गरम गरम पराठे आम का अचार और सिल्वर के मुंह बंद बर्तन में उबलती हुई चाय भेजी चाचे साईं चले अब्बास और मैंने नाश्ता किया बीबी और लाले ने उसे छू कर बिना देखा खा ले खा ले चाचा कभी बीबी और कभी लाले से कहता पेट से दुश्मनी ना कर पेट एक बीमारी का नाम है इसको खुराक देते जाओ तो आराम से सोया रहता है नहीं तो मगज़ भी काम नहीं करता खा ले हाथ आगे कर खा मगर ना बीबी और ना लाले ने आंख उठाकर रोटी को देखा रोटी ख़त्म करके चाचे ने चाय कटोरे में उंडेली और उबलती हुई चाय को फूकों से ठंडा किया फिर सुर्खियाँ लेकर पीने लगा दरवाज़ा खुला था अलियास कुमार ने बाहर से झाँक कर देखा आ जा चाचे अहमद ने आवाज़ दी अलियास चाचे अहमद के पास आकर खड़ा हो गया बैठ जा चाचे ने कहा चाय का प्याला पी ना चौधरी बैठना नहीं काम को जा रहा हूँ सवेरे खेत पर गया था सुनते ही जा पहुंचा था जुल्म हुआ है खुदा उनको इसका बदला देगा क्यों खुदा को कोई और काम नहीं चाचा बोला जुल्म जुल्म है चाचा जुल्म जुल्म से चुकाया जाता है दुरुस्त है चौधरी जोर आवरी का काम है ठीक है चाचे अहमद ने कहा जोर आवरी का काम है पता लग जाएगा एक बात करने आया था चौधरी कर कर वो गन्ने कुमार झिझकता हुआ बोला ख़राब हो गए हैं ठीक है इलियास चुप खड़ा रहा ये बात बताने आया था चाचे ने सख्ती से पूछा तेरा मगज ठीक है मैं ख्याल कर रहा था बात करूं कि ना करूं गन्ने तो ख़राब हो गए हैं चाचे अहमद ने यकदम हाथ से चाय का प्याला फेंक दिया उसमें एक घूंट चाय जो रह गई थी ज़मीन पर फैल गई उसी हाथ से चाचा तेज़ी से पैर की जूती उतार कर इलियास कुमार के पीछे भागा ठहर तेरे खुरो की माँ की इलियास कुमार पीछे पाँव छलांग लगाकर दौड़ पड़ा और दरवाजे की दहलीज पलांग कर गायब हो गया चाचा दरवाजे में खड़ा मुंह उठाकर उसे गालियां देता रहा चाचा तो खाम खा सख्ती करता है लाले ने कहा क्या मतलब तेरा चाचे ने जवाब दिया हमारे ऊपर ज्यादती हुई है और इसे अपने खुरों की पड़ी हुई है क्या हर्ज है लाले ने कहा गरीब आदमी है जा ओए सरफराजे कह दे ले जाए जितने ज़रूरत हैं खबरदार ओए चमड़ी अलग कर दूंगा चाचा मुझसे बोला हमारे गन्ने ठीक हैं या ख़राब हैं डंगरों के वास्ते नहीं हैं आखिर को तो डंगरों को ही खिलाने पड़ेंगे लाले ने कहा देखा जाएगा गन्ने उधर ही रहेंगे गांव का एक एक बंदा देखेगा रोज़ दिन चढ़े देखेंगे और शर्मसार होंगे तीन एकड़ फसल में ट्रैक्टर फिर गया और इन हराम खोरों को खबर ही नहीं हुई बाद में देखा जाएगा डंगर खाएंगे या बंदे लाला हार मानकर चारपाई पे लेट गया फिकर ना कर जाज चाचा बोला दो चार दिन सबर कर मैं अपने बंदों से बात करता हूँ बदला लेंगे कुछ खा पी के लेट पेट से बैर ना कर आज भी खाना कल भी खाना अभी खा ले लाले ने कोई जवाब ना दिया अब्बा इसका बदला लेना है बीबी ने कहा बीबी के अंदर हैरतनाक तब्दीली आ गई थी अब वो अपना भी भला दूसरों का भी भला वाली बात भूल चुकी थी तेरे कहने की कोई ज़रूरत है सको चाचे ने कहा मेरी पग उतर गई है बिस्ती का मुकाम है बदला लाजिम आता है सात एकड़ तो बच गया है बीबी ने कहा हम गुड़ बना लेंगे मगर उसकी मिल बंद करा देंगे लाला कड़वी सी हसी ऐसा हमारा गन्ना रुकने से कोई मिल बंद होती है बंद होती है या नहीं पर हमारा एक गन्ना उधर नहीं जाएगा खुदा जंगीर का बेड़ा गरक करेगा देख लेना मेरी बात पत्थर की लकीर है मैं और अब्बास उठकर घर से निकल गए हम गांव से बाहर बाहर फिर रहे थे मगर अपने कमात की जानब नज़र उठाकर देखने की मेरी हिम्मत ना हुई मैं बंदूक निकाल कर रातों रात जहांगीर को ख़त्म कर दूंगा अब्बास ने डींग मारी कैसे निकालेगा रात को लाले के साथ फसल पर सोऊंगा आधी रात को किसका लूँगा मैंने उसे बताया चाचे ने कहा है मैं और तू घर में बीबी के पास सोएंगे गांव में मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें थीं अगले दो रोज़ में चाचे और लाले ने अपने तौर पर यह पूछगिछ की कोई कहता था जहांगीर ने अपने आदमी भेजे थे किसी का कहना था उसने मलक हमीद के ज़रिए ये काम करवाया है क्योंकि सड़क पर टायरों के निशान पहले दिन भट्टे की जानब जाते हुए दिखाई दिए थे अंदरून खाना सबकी राय थी कि यह बरदरी वालों की आपस की लड़ाई है किसी बाहर के आदमी के दखल का मुकाम नहीं तीसरे दिन जंगीर का मुंशी आया मलक साहब ने फसल के नुकसान पर अफसोस का पैगाम भेजा है उसने कहा वो खुद तशरीफ़ लाने वाले थे मगर ज़रूरी काम आ जाने की वजह से नहीं आ सके कहते हैं फ़िक्र की कोई बात नहीं बाकी फसल को अच्छे रेट पर उठवा देंगे नुकसान पूरा हो जाएगा जब मुंशी ने पैगाम दिया तो मैं लाले के पास खड़ा था लाला सुनकर खामोश हो रहा गो उसने मुंशी को अंदर आने की दावत ना दी मुझे महसूस हुआ कि लाले को बाकी की फसल की फ़िक्र थी मगर बीबी शेर की तरह बिफरी हुई थी एक गन्ना भी जंगीर के भाड़ में गया तो इस जंगल से निकल जाऊंगी जा वो लाले से बोली अपने मज़दूरों को भड़का जो मर्जी हो कर मगर मिल बंद करा चाचे ने दौड़कर मुंशी को गली की टक्कर पर जा लिया और एक दरख्त की चमक से उसे पीटना शुरू कर दिया मुंशी जान बचा कर भागा शाबाश ए सक्को तूने मेरे दिल की बात की है चाचा वापस आकर बोला तू अवानों की बरादरी नहीं तेरे अंदर राजपूत कौम का खून है मैं सारा दिन घर से बाहर फिरता रहा अब्बास को चाचे ने घर बार की देखभाल के लिए वापस भेज दिया था और हिदायत की थी कि वहाँ पहुँच मासी को किसी कमी के साथ यहाँ भेज दे मैं गांव के बाहर दिन भर अकेला फिर फिर आकर वापस आ गया उस दिन के दौरान मेरे दिल के अंदर एक मध्यम सा इरादा शक्ल इख्तियार करता रहा था शाम को मैंने लाले से बात की शादरे के पास एक नई शुगर मिल बन रही है हाँ लाले ने कहा जड़ा वाले रोड पर तुझे किसने बताया है स्कूल में कोई लड़का बात कर रहा था मैंने कहा हम उनको कमाद बेच सकते हैं शहर की परली तरफ है लाले ने कहा बाहर बाहर से नहीं जा सकते जा तो सकते हैं मगर खर्चा बहुत आएगा हम अपना गड्ढा नहीं बना सकते मैंने कहा बना सकते हैं अपना गड्ढा हो तो माल लेकर जा सकता हूँ तू ले जाएगा लाला हंसकर बोला हाँ और पढ़ने कब जाएगा मैं एक सेकंड तक रुका रहा फिर हिम्मत करके बोला पढ़ने का क्या फ़ायदा हैं लाला चौंक पड़ा पढ़ने का क्या फ़ायदा ये तू कह रहा है कॉलेज में तेरे दाखिले के दो चार दिन रह गए हैं और तू कह रहा है पढ़ने का क्या फ़ायदा ये मैं क्या सुन रहा हूँ चार रोज़ में पहली बार लाले के चेहरे पर किसी जज्बे का रंग उभरा था मेरा वजीफ़ा ही कितना है मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है पैसे कहाँ से आएंगे तुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है ज़रूरत क्यों नहीं शुगर मिल का रास्ता तो बंद हो गया है मैंने कहा उस वक्त मुझे इस बात का इल्म नहीं था मगर मैं अंदर ही अंदर अब्बास की नकल करने की कोशिश कर रहा था वो मुझसे उम्र में एक आध साल ही बड़ा था मगर तौर तरीके में कई बरस पेशतर ही गोया सने बलोगत को पहुंच गया था अचानक लाला हंस पड़ा ये भी चार रोज़ में पहला मौका था कि उसके चेहरे पर हंसी नमोदार हुई थी हम सेहन में खड़े थे लाले ने मुझे बाजू से पकड़कर चार पाई पर बिठाया फिर मेरे साथ बैठकर संजीदगी से कहना शुरू किया देख सरफराज मैं जानता हूँ तुझे बहुत फिक्र है मुझे भी बड़ी फिक्र है मगर मैं तेरी तसल्ली के लिए असल सूरत हाल वाजे करना चाहता हूँ शुगर मिल की हमें ज़रूरत नहीं अगर हम गुड़ भी बनाएं तो पिछले साल की बचत मिलाकर तेरा दो साल का खर्चा आसानी से निकल आता है फिर अल्लाह वसीला पैदा करने वाला है मैं ये भी जानता हूँ कि तू हॉस्टल में रहेगा जिस कॉलेज का मैंने इंतखब किया है वो शहर के दूसरे कोने पर है रोज़ आने जाने में पढ़ाई का हर्ज होगा खर्चे का बंदोबस्त मेरे पास है मगर मेरी एक बात हमेशा याद रख आज के बाद मैं ये नहीं सुनना चाहता कि पढ़ने का क्या फ़ायदा मैं चाहता हूँ तू एम पास करे पीसीएस के इम्तिहान में बैठे पढ़ाई में तू जहाँ तक जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा वो जोर से बोला मुझे अगर मंडी में जाकर मजदूरी भी करनी पड़े तो तेरा खर्चा उठाऊँगा नाले की बात के आगे मेरी कुत बर्दाश्त ख़त्म हो गई मैं उठा और तेज़ कदम उठाता हुआ घर से बाहर निकल गया मगर अब बाहर की दुनिया के आगे मेरी मुदाफ़त ढाल की तरह मजबूत थी मैं सीधा अपनी ज़मीन पर गया और आंसुओं की झिलमिलाहट में उस गिरी हुई फसल की एक एक पोरी को देखता रहा जिसका रस सूख गया था और गांठे जलकर स्याह पड़ चुकी थी चार रोज के अंदर उस जीती जाती फसल का तुखम मुर्दा हो गया था ये वो दिन था जब एक मुहिब गुस्से का गुबार कर एक सख्त गुठली की सूरत में मेरे दिल के अंदर बैठ गया था उस दिन से मेरे अंदर कुवत हासिल करने की ख्वाहिश ने जन्म लिया था वक्त के साथ इस ख्वाहिश का रुख हर हमला आवर की जाने मुड़ता चला गया था उठो उठो सुबह सवेरे अहमद शाह ने लोहे के ग्लास में चमचा बजा बजा कर शोर मचाया उठो वह पुकारा वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी दौड़ो जमाना चाल चुप कर यार सवेरे सवेरे बोलियां बोलनी शुरू कर देता है सलीम ने सोई हुई गुसीली आवाज़ में कहा और पांसा पलट कर लेट गया घंटी बज गई है घंटी अहमद शाह बोला मीर साहब ने एक घंटे का नोटिस दिया है नौ बजे कमरा खाली मांगता है मीर साहब की माँ की गुलाम हुसैन ने बिस्तर पे आंखें खोलकर गाली दी ओए क्या तड़के मनहूस बोली बोलते हो ना खुदा का नाम ना रसूल का तुम्हें पता नहीं जंग लगी है अहमद शाह ने कहा अहमद शाह गुजरात के एक मामूली से गद्दी नशीनों का रिश्तेदार था और रोज़ाना फजर के वक्त उठकर नमाज़ पढ़ने और गर्मी हो या जाड़ा ठंडे पानी से नहाने का आदि था उसकी इस आदत से सब बेजार थे सुबह सवेरे वो अपने फ़राइज से फारी होकर सबको जगाता था तो उसका सुर्ख गालों वाला तरोताज़ा चेहरा देखकर दूसरे तीनों अपनी आंखें छुपा लेते और हाथ से उसे दफा होने का इशारा करते थे वो कांगड़ी पहलवान उठो वो कहा करता था ताज़ा पानी से नहाकर फजर पड़ने वाले को कभी कब्ज की शिकायत नहीं होती इस मीर साहब यहूदी को पता नहीं कि बाहर जंग लगी है गुलाम हुसैन ने कहा एक घंटे का नोटिस देता है दूसरे घंटे का पता नहीं मेरे दिल में तो एक ही हसरत है कि हमारे जाते ही यहाँ बम गिरे एक घंटे के नोटिस का इसे मज़ा आ जाए मेरा सारा प्रोग्राम तबाह कर दिया है आज शाम को राशिद ने मिलने का वादा किया हुआ था अब मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँगा जहाँ पहले लेकर जाते थे आज शाम को राशदा ने मिलने का वादा किया हुआ था अब मैं उसे लेकर कहाँ जाऊँगा जहाँ पहले लेकर जाते थे अहमद शाह शरारत से बोला पहले कहाँ मिली है यार गुलाम हुसैन मायूसी से बोला छः वादे करके दगा दे गई हराम खोर मगर आज के लिए तो उसने कसम लिख कर भेजी है ये देख वो कुर्ते की जेब से कागज़ का पुर्जा निकाल कर ऐसे इन हमाक से पढ़ने लगा गोया पहली बार उसके हाथ में आया हो ओए चुप कर घर जा और शरीफों की तरह ज़िंदगी गुजार तू किन बखेड़ों में पड़ गया है अहमद शाह ने कहा तुझे क्या फ़िक्र है गुलाम हुसैन बोला तेरी सैदानी तो घर बैठी तेरा इंतज़ार कर रही है ना ताकि तू आए और नमाज़ें पढ़ पढ़ के और ठंडे पानी से नहा नहा कर उसका दिमाग ख़राब कर दे देख लेना शादी के तीन महीने के बाद वावेला करती हुई घर से ना निकल गई तो मेरा नाम बदल देना सलीम ने गुलाम हुसैन के हाथ में कागज़ का पुर्जा देखा तो एकदम छलांग लगाकर बिस्तर से उठा ओहो हो हो हो मैंने तो फौजिया को ख़त लिखना है मीर साहब आप किसको कमरा दे रहा है सरफराज ने पूछा पता नहीं नौ बजे नए किराएदार आ रहे हैं बस ये कहकर चला गया है अहमद शाह ने बताया और हाँ ओए सुनो सुनो एक खबर सुनाना तो मैं भूल ही गया क्या खबर है नतीजा दो चार दिन में निकलने वाला है तुझे कैसे पता है आज मैं नमाज के बाद सैर के लिए निकल गया था वहाँ सुप्रिटेंडेंट शेख साहब मिल गए उन्होंने बताया है तू उस काजिब शेख की बात पर एतबार करता है हाँ उसके रिश्तेदार हमारे मुरीद हैं काजिब का क्या मतलब है इसका मतलब है झूठा वह इल्म हासिल करो तुम यहाँ आलू छोले बेचने नहीं आए आखिरी मंजर जो उस चौबारे का सरफराज की आंखों में रह गया था वो ये था अहमद शाह सबसे पहले तैयार होकर अपने संदूक और उसके ऊपर गोल बांधे हुए बिस्तर पर बैठा रेडियो की सुई घुमा घुमा कर मुख्तलिफ स्टेशनों से खबरें सुन रहा था सलीम जो ऐनक अपने संदूक में बंद करके भूल चुका था अपनी नाक कागज़ के साथ जोड़े जल्द जल्द ख़त मुकम्मल कर रहा था ख़त्म करने के बाद उसने कागज़ को दोरा तैरा करके धागे में लपेटा और धागे का सिरा एक छोटे से पत्थर के साथ बांधकर खिड़की में जा खड़ा हुआ खिड़की से सर बाहर निकाल कर उसने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई और पत्थर से बंधा खत अपनी महबूबा के कोठे पर फेंक दिया चला चल कबूतर लिफाफे की चाल अहमद शाह ने रेडियो से ध्यान हटाकर कहा ना तुम लोग कभी यहाँ आओगे ना कोई मौका मिलेगा और ना कभी मुलाकात होगी सरफराज ने कहा इतने तरद का क्या फ़ायदा क्या फ़र्क पड़ता है सलीम ने कहा याद तो रखेगी ना याद रखने से क्या फ़र्क पड़ता है ये रोमांस है रोमांस पेंडू अहमद शाह बोला किसी घर की लड़की को पकड़कर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम छोटी मोटी नौकरियां कर करके घर बैठ जाओगे सरफराज ने कहा तुम्हारा सारा रोमांस निकल जाएगा तुझे इन बातों का क्या पता सलीम ने सरफराज से कहा तेरी ना माँ ना बहन तेरी तो शादी भी नहीं होगी मैं तो नायब तहसीलदार बनूंगा अहमद शाह बोला गवर्नर का वादा मिल चुका है बस बीए करने की शर्त है बीए कैसे करेगा तुझे तो एफए भी नहीं आती तेरी किस्मत में तावीज़ बनाना ही लिखा हुआ है गुलाम हुसैन ने उसल खाने से आवाज़ देकर कहा वो बालों में कंगी कर रहा था और बार बार कंगी को गौर से देखता उसे दीवार के साथ झटक झटक कर खुशकी निकालता और फिर बालों में फेरने लगता था नौ बजने वाले थे अलविदा का वक्त आ पहुंचा था सब एक दूसरे से गले मिले दोनों हाथों से दस्त पंजे दबा दबा कर हिलाते रहे और हाथ हिला हिलाकर रुखसत हुए नौ बजने वाले थे अलविदा का वक्त आ पहुंचा था सब एक दूसरे से गले मिले दोनों हाथों से दस्त पंजे दबा दबा कर हिलाते रहे और हाथ हिला हिलाकर रुखसत हुए सरफराज गोल बिस्तर की रस्सी कंधे और गर्दन से निकालकर बिस्तर को पुश्त पे लिए और संदूक हाथ में उठाए बस के अड्डे की जानब चला जा रहा था एक होटल के सामने एक गर्द आलू जीप आकर रुकी जीप से दो नौजवान फौजी अफसर निकले जीप की तरह दोनों अफसर भी गर्द में अटे हुए थे यूँ मालूम होता था जैसे खुश्क मट्टी के छींटों से नहाकर निकले हों उनके सर नंगे थे और बालों की लटें गर्द की वजह से अकड़ी हुई थीं उनकी भवें तक खाकी हो रही थीं उनको दाढ़ी मुंडवाए गालिबन हफ्ता दस दिन हो चुके थे सरफराज ने उनके शानों पर नज़र डाली तो मालूम हुआ के दोनों कप्तान थे वो मुकम्मल जंगी वर्दी में मलबूस थे यूं लगता था जैसे सीधे किसी खंदक से निकलकर आ रहे हों जीप से निकलने के बाद दोनों ने अपनी रानों पर हाथ मारकर मट्टी झाड़ने की कोशिश की गर्दो गुबार का एक छोटा सा बादल नमोदार हुआ जिसके बीच घिरे हुए दोनों अफसरों ने एक दूसरे को देखा और कपड़े झाड़ने की मजीद कोशिश तर्क कर दी फिर वो मुड़कर होटल के अंदर चले गए उनके बदन से गो इंतहाई थकन के आसार नुमाया थे और उनके कंधों में खफीफ सा झुकाव था मगर उनकी चाल में एक ऐसी तफखराना शाल थी मगर उनकी चाल में एक ऐसी तफखराना शान थी कि उसके असर से गोया मशहूर होकर सरफराज उनके पीछे पीछे होटल में दाखिल हो गया दरमिया दर्जे के होटल के हॉल कमरे में तीन चौथाई मरीजों के दरमियाने दर्जे के होटल के हॉल कमरे में तीन चौथाई मेज़ों के गिर्द लोग बैठे मुख्तु किस्म के नाश्ते कर रहे थे जैसे ही लोगों ने फ़ौजी अफसरों को दाखिल होते देखा उनके चलते हुए मुंह और हरकत करते हुए हाथ रुक गए चंद लहजों तक वो सब नज़र जमाए उन दोनों को हॉल के पिछले सिरे से एक खाली मेज़ तक जाते हुए देखते रहे अभी वो अपनी कुर्सियों पर बैठने भी ना पाए थे कि हॉल में सब तरफ पाँव घसीटने की आवाज़ें उठने लगीं दोनों कप्तानों ने अपनी खुद कार गने मेज़ पे रखी और कंधे से खाकी थैले उतार कर कुर्सियों के पास ज़मीन पर रख दिए फिर जैसे किसी अनकहे इरादे के तहत हॉल में बैठे हुए सब लोग एकदम अपनी जगह से उठ खड़े हुए और एक साथ ज़ोर से तालियां बजाने लगे कप्तानों ने मुड़कर हैरत से ये मंज़र देखा कि सब लोगों के रुख उनकी जानब थे नज़रें उन पर लगी थीं और वो उनकी तरफ हाथ बढ़ा बढ़ाकर तालियां बजा रहे थे एक लहजा वो बेसमझ नज़रों से इन लोगों को देखते रहे फिर जब उन्हें असल मामले का एहसास हुआ तो दोनों के चेहरे पर सुर्खी का हल्का सा रंग दौड़ गया वो झिपते हुए मुंह मोड़कर कुर्सियों पर बैठ गए मगर तालियां थीं कि बजे जा रही थीं आखिर दोनों कप्तानों ने बैठे बैठे मुड़कर देखा और हाथ उठाकर तालियों का जवाब दिया तालियां रोककर हॉल के सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियां मेज़ें छोड़कर दोनों फौजियों की जानब दौड़ लगा दी फौजी अफसरों ने शियलगार को देखा तो अपनी गन्ने मेज से उठाकर दीवार के साथ खड़ी कर दी अब लोगों का हजूम उन दोनों की पीठ ठोंक रहा था एक एक बंदा घुस घुसा कर आगे निकलने की कोशिश में था और फौजी नौजवान की पीठ थापना चाहता था जिंदाबाद जिंदाबाद वो साथ साथ पुकारते जा रहे थे जमघटे के अकब में दो बहरे चाय के बड़े बड़े ट्रे उठाए हुए रुके खड़े थे एक ट्रे में चाय के बर्तन और दूसरे में केक पेस्ट्री उबले हुए अंडे फ्राई अंडे और बिस्किटों का ढेर था एक आदमी पीठ थपका कर हजूम से निकला तो उसकी नज़र बैरों पर पड़ी उसने जल्दी से जीप में उसने जल्दी से जेब में हार डाला और बटवे से सौ रुपये निकाल कर बैरों के साथ खड़े हुए होटल के मैनेजर के हाथ में पकड़ा दिए उनसे पैसे नहीं लेना उसने कहा क्या मतलब तेरा कि खालिश नहीं चाचे अहमद ने सख्ती से पूछा दवा मिली हुई है खुदा बख्श ने कहा देख चौधरी गुल अफरोज़ भड़क कर बोला तुम घर में काला गुड़ खाता है नहीं खुदा बख्श ने जवाब दिया सफ़ेद गुड़ खाता है हाँ सफ़ेद कैसे होता है रंग काट से होता है तो फिर वो कोई आसमान से उतरा है वो पाउडर भी दवाई ये पाउडर भी दवाई दोनों फायदेमंद दवाई है एक मैल निकालता है दूसरा गुड़ को जोड़ता है मेवे को ताज़ा रखता है और जो चौधरी अगर दवाई पसंद नहीं तो मैं कवार गंदल से बनाकर दिखाता हूँ मगर एक चुटकी दवाई जितना काम करता है इसके बराबर कवार गंदल का गट्ठा ज़रूरत है वो तुम ढूंढ कर लाएगा खुदा बख्श से जवाब ना बन पड़ा तो ठंडा हो गया गो दो एक बार उसने जेरे लब ना खालिज ना खालिज कहा मगर सबको उसकी ची तबीयत का इल्म था किसी ने उसकी तरफ ध्यान ना दिया तजर्बा कामयाब रहा पहले रोज़ गुड़ मंडी में गया तो आड़तियों ने शक की नज़र से देखा पेशावरी है हाँ एजाज के आदमी ने कहा उस रोज़ गुड़ की नीलामी ना हुई और टोकरियों को आड़तियों के गोदाम में रखवा दिया गया अगले रोज़ चाचे अहमद ने तजवीज़ पेश की कि आइंदा से गुल अफरोज़ को गुड़ की टोकरियों के हमरा मंडी में भेजा जाए वो जाहिर करे कि गुड़ पिशावर से लेकर आया है गुल अफरोज़ खान ने उस वक्त जहानत का सबूत दिया छः सात टोकरी रोज़ पिशावर से कैसे आएगा वो बोला सात दिन का स्टॉक इधर करो फिर रेड़े पर लाद कर ले जाओ बोलो कि पिशावर से बिल्टी आया है मंडी वाला फिर मानेगा ऐसा ही किया गया गुल अफरोज़ खान से बात करके आड़तियों ने मज़ीद पूछ किए बगैर कम से कम भाव की हद तय कर ली दुकानदारों को इतला पहुंच गई कि मेवे वाला एक नंबर पिशावरी गुड़ सस्ते दामों बिक रहा है देखते ही देखते आठ दिन की खेप उठ गई मुकाबलतन सस्ते भाव बेचने के बाद भी हिसाब लगाने पर यह गुड़ सादे की नस्बत तीन गुना कीमत दे गया मेवे की कीमत रेड़े के कराए और गुल अफरोज की मजदूरी निकाल कर सौ फीसद मुनाफा निकला इजाज के हिसाब के मुताबिक शुगर मिल को बेचने की नस्बत सत्तर अस्सी फीसद ज़्यादा मुनाफा हुआ था उसे यकीन ना आ रहा था कि घर से निकली हुई स्कीम इतनी हैरतनाक कामयाबी हासिल कर सकती थी वह हर किसी की एहसान मंदी और बंदिश से आज़ाद हो चुका था दो हफ्ते की आमदनी में से पैसे निकाल कर उसने मीठे चावलों की दो देगे पकवाई और गांव भर में तकसीम की एजाज का आधा कमाद अभी कटा ना था उसने गुल अफरोज खान को फसल के अख्ताम तक कुल वक्ती मुलाजमत पर रख लिया गुल अफरोज़ खान कारखानों में दिहाड़ी की मजदूरी करता था उठकर एजाज के पास आ गया उसने दिन रात का डेरा फसल पे लगा लिया और गन्ने की कटाई गुड़ की बनाई संभाल और लदान से लेकर मंडी तक नीलामी और आड़तियों से रकम की वसूली का काम अपने ज़िम्मे ले लिया आहिस्ता आहिस्ता बात गांव से निकलकर मंडी में पहुंच गई और आड़तियों को इल्म हो गया कि गुड़ पिशावर से नहीं बल्कि शुजाबाद से गुल अफरोज़ खान पिशावरी की निगरानी में बन कर आता है मगर इससे कोई फर्क ना पड़ा माल चल निकला पहली बार एजाज की जेब में इतनी रकम आई थी कि उसने शहर के बैंक में जाकर अपने नाम का हिसाब खोला था एजाज के अंदर एक और तब्दीली भी पैदा हो गई मलक जहांगीर ने गुड़ की कामयाबी पर अपने मुंशी के हाथ एजाज को मुबारकबाद का पैगाम भेजा इस बेमुराद की अब किसको ज़रूरत है सकीना ने कहा ज़रूरत की बात नहीं सकीना एजाज बोला वक्त की बात है वक्त अब उसका है या हमारा उनका भी है और हमारा भी है एजाज ने कहा वक्त आए तो हाथ को रोक के रखो इसी में फ़ायदा है फ़ायदा किस बात का हमने अपना फ़ायदा खुद कमाया है ज़्यादती उसने की थी या हमने ठीक है मगर हर जाने की पेशकश भी उसने ही की थी फिर वो चल के भी आया था हमने हर बार उसे ठुकरा दिया अब वह मुझसे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता फिर भी पेशकदमी कर रहा है क्यों सोचने वाली बात है फिर कोई बदमाशी उसके दिल में होगी सकीना ने कहा बदमाशी हो या कुछ और हो मगर ये दुनियादारी है इसे सियासत भी कहते हैं तुझे इन बातों की समझ नहीं फिर समझाऊं सकीना फिर समझाओ सकीना तड़क कर बोली सियासत के ज़ोर पर ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और हम लोगों को छोटी छोटी बातों में उलझाए रखते हैं हम लोग चार पैसे कमाकर इनके मुकाबले पर नहीं आ सकते इनका सामना करने का एक ही तरीका है कि इनके तौर तरीके अपनाओ इनको पछाड़ना है तो उनको उन्हीं की सियासत से मारो सकीना बेसमझी से आंखें वाह किए एजाज को देखने लगी एजाज दरवाजे पर खड़े मुंशी के पास गया ठीक है करीम शाह वो मुंशी से बोला मलक साहब से कहना पैगाम का शुक्रिया आपकी दुआएं और अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो खैर ही खैर है मुंशी करीम शाह ने एजाज की बात सुनी तो सारे दांत निकाल कर हंसा और सलाम लेकर चला गया सकीना देर तक खामोश बैठी रही मगर सरफराज को एजाज के मिजाज में इस तब्दीली की दरक हो गई खुशगवार हैरत के साथ वो सोचता रहा कि यह तब्दीली कैसे रूनुमा हुई इसके पीछे कारोबार की कामयाबी था या कि मज़दूरों के दरमियान उसकी कामरानी जिसकी कम अज़ कम तीन अंजुमनों को मिलाकर उसने एक यूनियन बना डाली थी गो इसमें उसका एड़ी चोटी का जोर लग गया था जो कुछ भी था इस खुद एतमादी पे उसने एजाज के अंदर और उसके ज़रिए अपने आप में एक नई कुवत की लहर दौड़ती हुई महसूस की एजाज की तबीयत में एक नरम रवि और लचक पैदा हो चुकी थी जिसकी बदौलत वो बड़ी से बड़ी बात को भी सब्र और तहमुल के साथ लेता और हर पहलू से सोच कर फैसला करता था सरफराज को यकीन था कि इस तब्दीली का बड़ा हिस्सा एजाज के मज़दूरों के साथ काम करने का नतीजा था सरफराज ने देखा कि गांव के लोगों को भी कुदरती तौर पर इस हकीकत का फहम हो चुका था और वह पहले से भी ज़्यादा अपने छोटे छोटे मसलों के बीच एजाज से मशवरे लेने के लिए आने लगे थे जिस रोज़ सरफराज को पहले इंटरव्यू के लिए ख़त आया इत्तफाक से वो घर पे मौजूद ना था ख़त एजाज के हाथ लग गया जब सरफराज घर पहुंचा तो उसने एजाज के चेहरे पे एक अजीब सी कैफियत देखी सरफराज का राज फाश हो चुका था इतने दिनों के अंदर पहली बार उसे एजाज की तबीयत में हलचल के आसार नज़र आए थे मगर एजाज ने अपने ऊपर काबू पाए रखा उसने नरमी से हकीकत हाल दरियाफ्त की सरफराज ने बता दिया अब वो दिल को थामे खड़ा था कि एजाज पूछेगा क्यों या पूछेगा कि पढ़ाई का क्या बनेगा या कोई ऐसी बात करेगा जिससे सरफराज का दिल भर आएगा और वो जवाब ना दे सकेगा मगर एजाज उस ख़त पर नज़रें जमाए खामोश बैठा रहा कई मिनट का वक्फा गुजर गया जिसके दौरान एजाज की तेज़ तेज़ चलती हुई सांस धीमी होती हुई हमवार हुई और फिर मादूम हो गई चंद लम्हे के लिए एजाज का सकूत ऐसा मुकम्मल था जैसे वो कहीं दफन हो गया हो सरफराज का जी घबराने लगा वो जाकर एजाज के पास चार पाई पे बैठ गया जब एजाज ने सर उठाया तो उसकी आंखें जिनकी चमक उसके चेहरे की एक ख़ास शय थी और लोग जिसका जिक्र किया करते थे धुंधलाई हुई थी जैसे उनके सितारे बुझ गए हों उसने खामोशी से कागज़ सरफराज की जानी बढ़ा दिया ठीक है लाला हाँ कुछ देर के बाद एजाज ने जवाब दिया ठीक है ये अभी पहला इंटरव्यू है सरफराज ने कहा खुदा जाने पास भी होता हूँ कि नहीं हो जाओगे एजाज ने होले से कहा सरफराज का दिल मुसलसल बैठता जा रहा था जैसे किसी ने उस पर एक मन का वज़न रख दिया हो लहजा ब लहजा उसे एजाज की बातें याद आ रही थी जो वो कभी ना कभी वक्फे वक्फे पर करता रहा था सबसे मुश्किल इम्तहान मैट्रिक का होता है एफ़ का उससे आसान होता है फिर बीए का उससे भी आसान और एमए में तो सिर्फ एक ही मजमून होता है एक बार वहाँ तक पहुँच जाओ तो ऐसे वो चुटकी बजा कर कहता है निकल जाओगे असल ताकत अमीरों वज़ीरों में नहीं होती असल ताकत सिर्फ हकूमत के अफसरों में होती है क्या गरीब क्या अमीर और क्या वज़ीर सब उन्हीं से काम कराते हैं बस मुकाबले का इम्तहान पास करने का मसला है फिर तुम मजिस्ट्रेट बनो सब जज बनो या डीएसपी लगो समझ लो कि इकतदार तुम्हारे हाथ में आ गया मलक जहांगीर और मलक हमीद जैसे लोग तुम्हारे दफ्तर में जूतियाँ चटकाते फिरेंगे इन ख्याल को रोकने और अपने दिल का वज़न उठाने का सरफराज को एक ही तरीका सूझ रहा था कि वो बातें करता जाए और एजाज की ज़बान खोले हाजिरी ज़रूरी नहीं है लाला एजाज उसी लहजे में तवक़ से बोला क्यों नहीं ज़रूर जाओ लाला वहाँ पढ़ाई भी होती है बीए की डिग्री मिलती है अच्छा एजाज बेख्याली से बोला फिर तो ठीक है मेरी मर्जी है जाओ या ना जाओ सरफराज बेताबी से बोला एजाज एक मिनट तक खामोश रहा मेरी मर्जी है जाऊं या ना जाऊं सरफराज बेताबी से बोला एजाज एक मिनट तक खामोश रहा फिर उठ खड़ा हुआ बाहर जाते हुए वो होले से बोला तुम्हारी मर्जी है भाई जाओ क्यों नहीं जाते ये भी अच्छी लाइन है सूरज सर से ढल रहा था घर की दीवारों से लिपटी हुई धूप सपहर की खामोशी में इजाफा कर रही थी कमाल राजदारी से यह सकूत सरफराज के दिल में राह पा गया था तुम्हारी मर्जी है भाई एजाज के इन चार अल्फाज ने उसके अंदर एक वसी यख बस्ता खला पैदा कर दिया था इस वसत में उसने अपने आप को एक ही जस्त के अंदर लड़कपन की हदूद से निकलकर जवानी में दाखिल होते हुए देखा जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक एक काम करने पर कादिर बना दिया गया था इस मुहिब जिम्मेदारी के एहसास ने उसके दिल में खौफ की परछाई पैदा कर दी थी साथ ही साथ उसने महसूस किया कि जिन सैकड़ों तारों से वो एजाज के साथ बंधा हुआ था उनमें से एक तार कहीं से चनक कर टूट गई है दरवाजे से बाहर जाती हुई एजाज की पुश्त देर तक उसकी नज़रों के सामने रही और ज़िंदगी में पहली बार सरफराज ने दुनिया में अपनी ज़ात के अकेलेपन को ऐसी शिद्दत से महसूस किया कि उसके अंदर का खला फैल कर उसके गिरदा गिर्द लिपट गया सूदो ज़िया के उसके घने एहसास को थामे वो चारपाई पे गुमसुम बैठा रहा सामने वाली सफ़ेद मट्टी की दीवार पर चमकती हुई धूप ने शीशे की शक्ल इख्तियार कर ली जो उसके देखते ही देखते बीच से आहिस्ता आहिस्ता तिड़कने लगा